भगवान नई प्रवचन माला के प्रारंभ में हमारा प्रेम वो प्रणाम स्वीकार करें प्रज्ञा पुरुष लाउसे ने ताओते किंग में कहा है अध्याय सड़सठ खंड एक शीर्षक तीन खजाने सब संसार कहता है मेरा उपदेश ताओ मूर्ता से बहुत मिलता जुलता है क्योंकि यह महान है इसलिए यह मूर्ता से मिलता जुलता है और यदि मूर्ता जैसा यह नहीं लगता तो यह सब का तुच्छ हो गया होता मेरे तीन खजाने हैं उन पर पहरा दो और उन्हें सुरक्षित रखो पहला है प्रेम दूसरा है अति कभी नहीं तीसरा है संसार में प्रथम कभी मत होना प्रेम के जरिए आदमी अभय को उपलब्ध होता है अति नहीं करने से आदमी के पास आरक्षित शक्ति का अतिरेक होता है और संसार में प्रथम होने की धृष्टता नहीं करने से आदमी अपनी प्रतिभा का विकास कर सकता है और उसे प्रौढ़ बना सकता है chapter 67 part one the three treasure all the world says my teaching Tao greatly resembles folly because it is great therefore it resembles folly If it didn't resemble folly, it would have long ago become petty indeed. I have three treasures Guard them and keep them safe. First is love. The second is never too much. And third is never be the first in the world. Through love one has no fear. Through not doing too much one has amplitude of reserve power. Through not presuming to be the first in the world one can develop one's talent and let it mature. भगवान इसका अभिप्राय हमें समझाने की अनुकंपा करें आंखें जब अंधेरे की आदि हो जाए तो प्रकाश अंधकार जैसा मालूम होगा अंधेरे में ही तुम जिए हो तो आज अचानक सूरज द्वार पर आ जाए तो उसकी चकाचौन में तुम्हारी आंखें बंद ही हो जाएंगी प्रकाश को समझने के लिए प्रकाश की यात्रा प्रकाश का स्वाद प्रकाश का जीवन में प्रशिक्षण चाहिए परमात्मा को खोजने बहुत लोग निकलते हैं लेकिन परमात्मा अगर तुम्हें राह पर मिल जाए और बहुत बार मिलता है तो तुम उसे पहचान न पाओगे तुम उसे पहचानोगे कैसे तुमने अब तक जो जाना है उससे तो वो बिल्कुल भिन्न है तुम्हारा अब तक जो भी ज्ञान है उस ज्ञान से तो उस परमात्मा को तुम बिल्कुल भी ना पहचान पाओगे दो ही उपाय अगर तुमने अपना ज्ञान पकड़ा तो परमात्मा सामने भी होगा तो दिखाई ना पड़ेगा दूसरा उपाय है अगर तुमने अपना ज्ञान छोड़ दिया तो परमात्मा सामने ना भी हो तो भी सब तरफ वही दिखाई पड़ेगा तुम्हारी ज्ञान की पकड़ तुम्हें अंधा बनाए हुए है इसलिए जब भी कभी किसी व्यक्तित्व में परमात्मा की ज्योति उतरती है तो हम उसे पहचान नहीं पाते अन्यथा जीसस को सूली पर चढ़ाने की जरूरत क्या थी और जिन्होंने जीसस को सूली पर चढ़ाया उनको भी भ्रांति है कि वे परमात्मा के खोजी और प्रेमी है न केवल यही बल्कि उन्हें लगता है कि जीसस परमात्मा का दुश्मन है जीसस को वे न पहचान पाए परमात्मा को तो कैसे पहचानेंगे जीसस तो एक किरण है उसकी वो भी पहचानी ना जा सके तो जब समग्र सूर्य तुम्हारे सामने होगा तब तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे तुम्हें सिवाय अंधकार के और कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा इसलिए ज्ञानी अक्सर अज्ञानियों के बीच महाअज्ञानी मालूम पड़ता है ऐसा ही समझो कि तुम सब अंधे हो और एक आंख वाला व्यक्ति भूल चूक से पैदा हो जाए तो सारे अंधे मिलके या तो उसकी आंखें फोड़ देंगे क्योंकि वे बर्दाश्त न कर सकेंगे और अंधों का तर्क ये होगा कि कभी तुमने सुना है कि आंख वाला आदमी होता है जरूर प्रकृति की कहीं कोई भूल हो गई है अंधा ही होता है आदमी आंखों में कहीं कुछ भूल है यही ज्ञानियों के साथ हमारा व्यवहार रहा है हम पूजते हैं उन्हें जब वे मर जाते हैं क्योंकि मृत्यु की भाषा हम समझते जीवन की भाषा का हमें कुछ भी पता नहीं जब उन्हें कब्रों में दफना देते हैं तब हमारे पूजा के फूल बड़े मुखर हो उठते तब हमारे अर्चना के दिए जलने लगते हैं क्योंकि अब हम समझ सकते हैं कब्र में जो मौत है वो हमारी समझ में आ सकती है कब्र में सिर्फ अंधेरा है अंधेरे के हम आदि हैं हम मृत्यु में ही जीते रहे जीवन को हमने कभी जाना नहीं जीवन हमारी आशाओं में रहा है सपनों में लेकिन उसकी कोई प्रतीति हमें कभी हुई नहीं हम केवल मृत्यु से भयातुर मृत्यु से घिरे कपते हुए जिए मृत्यु को हम समझ सकते इसलिए जैसे ही कोई ज्ञानी व्यक्ति मर जाता है हजारों उसकी कब्र की पूजा पर संलग्न हो जाते मंदिर मस्जिदें खड़ी होती हैं गुरुद्वारे बनते हैं और जब ज्ञानी जीवित होता है तब सिर्फ लोग पत्थर ही फेंकते हैं तब सिर्फ लोग निंदा ही करते हैं गणित साफ है जब ज्ञानी जीवित होता है तब तुमसे उसका कोई तालमेल नहीं बैठता तुम अंधेरे के निवासी हो वो रोशनी की खबर लाया ये शब्द तुमने कभी सुना नहीं शब्द भी सुना हो तो इस शब्द के रहस्य को तुमने कभी अनुभव नहीं किया वो किसी अनजान देश से आया है वो कुछ अजनबी बातें कह रहा है और उन बातों पर भरोसा करना खतरनाक है खतरनाक इसलिए है कि अगर तुम उन बातों पर भरोसा करोगे तो तुम्हारी जो सुव्यवस्थित गुलामी है वो खंड खंड हो जाएगी जो तुम्हारा सुव्यवस्थित अंधकार है अंधकार में तुमने अपना घर बना लिया है अंधकार को तुमने खूब साज संवार लिया है तुमने अंधकार को खूब सजावट और श्रृंगार से भर लिया है तुम भूल ही गए हो कि ये अंधकार है तुमने अपनी जंजीरों पर भी हीरे मानिक लगा लिए और तुमने उनको आभूषण मान लिया है तुमने अपनी मृत्यु को भी जीवन समझ रखा है अगर तुम ज्ञानी की बात सुनोगे तो खतरा है खतरा यही है कि वो तुम्हें अस्तित्व कर देगा वो तुम्हारी सारी व्यवस्था को तोड़ देगा तुम्हारी सारी सुरक्षा की नीवे हिल जाएंगी और तुमने जो भवन बड़ी मेहनत से बनाया है जन्मों जन्मों में अगर तुमने ज्ञानी का एक शब्द भी सुन लिया तो तुम पाओगे कि वो रेत का भवन है अब गिरा तब गिरा तुमने सांस के पत्तों का घर बना लिया है तुम उसके भीतर बड़े प्रसन्न हो पता चल जाए कि ताश का घर है तुम फिर कैसे प्रसन्न रह पाओगे फिर दूसरे और असली घर की खोज पर निकलना होगा और यात्रा दुर्गम है और कभी कोई पहुंचता है हजारों चलते एकांत पहुंचता है इसलिए सरल यही है तुम्हारे अज्ञान में कि तुम कह दो इस ज्ञानी को कि ये मूड है पागल है ये तुम्हारे बचने का उपाय है ये तुम्हारी सुरक्षा है जब तुम ज्ञानी को कह देते हो कि मूड है तब तुम अपनी मूर्ता को बचा लेते हो जब तुम ज्ञानी को कह देते हो पागल है तब तुम अपने पागलपन को बचा लेते हो क्योंकि तुम दो में से ही कोई एक सही हो सकता है दोनों नहीं अगर बुद्ध सही है अगर क्राइस्ट सही है अगर मैं सही हूं तो तुम गलत हो और समझौता यहां ना चलेगा या तो मैं सही हूं या तुम सही हो ज्ञानी का कोई समझौता अज्ञानी से नहीं होता क्या समझौता करोगे कैसे मिलाओगे अंधेरे और रोशनी को कभी कोशिश की है लोग कहते हैं पानी में तेल नहीं मिलाया जा सकता लेकिन यह भी हो सकता है कि पानी में तेल किसी तरकीब से मिला लिया जाए लेकिन अंधेरे में रोशनी कैसे मिलाओगे अंधेरा अभाव है प्रकाश का तो अभाव को भाव से कैसे मिलाओगे प्रकाश होता है तो अंधेरा हो नहीं सकता अंधेरा होता है तो प्रकाश हो नहीं सकता दोनों अलग अलग ही हो सकते हैं उनके बीच कोई समझौता नहीं है एक ही उपाय है अगर तुम ज्ञानी को सुनने को राजी हो जाओ एक क्षण भी मौका दो जरा सा झरोखा खोलो अपने हृदय का तो तुम मुश्किल में पड़ोगे क्योंकि तुम्हारे बनाए हुए सब घर झूठे हो जाएंगे तुम्हारे बनाए हुए सारे इंतजाम व्यर्थ हो जाएंगे तुमने जो सजावट की है वो सारी सजावट तुमने कागज के घर में कर रखी है वो घर गिरेगा वो घर गिर ही रहा है उस घर में आग लगने वाली है उस घर में आग लगी ही है अगर तुम ज्ञानी की सुनोगे तो तुम्हें अपने इन घूलों को छोड़कर बाहर आना होगा वो तुम्हें खुले आकाश का निमंत्रण देता है वो तुम्हें स्वतंत्रता के लिए पुकारता है परम मोक्ष की तरफ उसका इशारा है डर लगता है अज्ञात में जाने में भय पकड़ता है जिन रास्तों पर हम चले नहीं उन पर वो बुलाता है जिन मार्गों को हमने कभी छुआ नहीं तो उन पर निमंत्रण देता है और कोई नक्शा नहीं है उन मार्गों का कि तुम्हें आश्वस्त किया जा सके उन मार्गों को कोई भी पूरा जान नहीं पाया है कि नक्शे बनाए जा सके परमात्मा के नक्शे कभी भी ना बनाए जा सकेंगे क्योंकि वो कोई जड़ वस्तु नहीं है गत्यात्मक है प्रतिपल रूपांतरित हो रहा है प्रतिपल पूर्ण से पूर्ण तरफ की तरफ जा रहा है तो केवल साहसी ही आ सकते हैं इस अभियान में तो फिर तुम क्या करोगे अपने भय को अपनी कायरता को कैसे छिपाओगे क्योंकि ये स्वीकार करने से भी पीड़ा होती है कि मैं कायर हूं ये स्वीकार करने से भी अहंकार को बड़ी चोट पहुंचती है कि मैं अज्ञानी हूं इसलिए जो भी ज्ञान का संदेश लेके तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है वो तुम्हारे अहंकार पर चोट करता है जो भी तुम्हारे पास लेकर आता है ज्ञान बांटने को वही तुम्हें दुश्मन जैसा मालूम पड़ता है क्योंकि अगर तुम ज्ञान लेते हो तो तुम अज्ञानी थे अगर तुम उसका निमंत्रण स्वीकार करते हो तो अब तक तुमने जो यात्राएं की वो व्यर्थ ही गई उनमें कोई भी तीर्थ यात्रा न थी अब तक तुम भटके अगर तुम गुरु को स्वीकार करते हो तो उस स्वीकार में ये छिपा है कि अनंत अनंत जन्मों तक तुमने जो यात्रा की वो तुम्हारी भटकन थी भटकाव था गुरु को स्वीकार करने का अर्थ है जन्मों जन्मों के अहंकार को छोड़ देना बहुत कठिन है अहंकार तर्क खोजता है अहंकार कहता है ये आदमी मूल मालूम होता है मैंने सुना है एक सूफी कथा है कि एक आदमी परम गुरु की तलाश में था बीस वर्षों तक उसने खोज की न मालूम कितने गुरुओं के पास गया लेकिन कुछ न कुछ भूल उसने निकाल ही ली गुरु में कुछ न कुछ कमी मालूम पड़ी कोई गुरु हंसता हुआ मिला तो उसने सोचा ये भी कोई गुरु हो सकता है गुरु तो गंभीर होते हैं हमारे पास शब्द है गुरु गंभीरता उसने कहा यह भी कोई गुरु हो सकता है संसारियों जैसा हंस रहा है और गुरु मिले जो बिल्कुल उदासीन थे उदास थे उसने कहा यह भी कोई गुरु है जिसके चेहरे पर आनंद की जरा भी झलक नहीं ऐसा हर जगह उसने कुछ न कुछ खोज लिया कोई गुरु उपवास करता था तो उसने सोचा ये तो आत्मघात है और कोई गुरु ठीक से खाता पीता था तो उसने कहा ये तो निपट भोगी है बीस वर्ष अनेकों गुरुओं के पास गया लेकिन परम गुरु परफेक्ट मास्टर नहीं मिल सका बीस साल बाद थक गया मौत भी करीब आने लगी इसलिए मापदंड उसने थोड़े शिथिल कर लिए कि अब तो मरने के करीब आ रहा हूं अब तो थोड़ा कमोबेश भी मिल जाए अठारह उन्नीस भी चलेगा न हुआ बीस लेकिन अब मौत करीब आ रही तो जब उसने अपने मापदंड थोड़े शिथिल किए एक गुरु मिल गया जो उसे लगा की परिपूर्ण सब तरफ से जांच परख करके उसने भरोसा कर लिया एक दिन सुबह जाके गुरु के चरणों में उसने निवेदन किया कि मैं परम गुरु की तलाश में था बीस साल भटका अंततः आप मिल गए मेरी यात्रा पूरी हुई क्या आप परम गुरु हैं गुरु ने कहा अगर मैं कहूं हूं तो वही कारण बन जाएगा मेरे परम गुरु न होने का अगर मैं कहूं नहीं हूं तो जब मैं खुद ही कह रहा हूं कि नहीं हूं तो सवाल ही कहां उठता है लेकिन अब तुमने पूछ ही लिया है तो मुझे तो पता नहीं कि मैं परम गुरु हूं या नहीं लेकिन ऐसी मेरी ख्याति है लोग कहते हैं ऐसा लोग कहते हैं कि ये परम गुरु है तो उसने कहा ठीक मैं भी थक गया हूं खोजते खोजते और आपने भी मुझे डरा दिया लेकिन अब बहुत हो गई खोज मौत करीब आती तो मैं तो स्वीकार करने को राजी हूं तो परम गुरु की तलाश में था आप मिल गए मुझे शिष्य की तरह स्वीकार कर उस गुरु ने कहा ये जरा मुश्किल है शिष्य ने कहा क्यों मुश्किल है मैं मरने के करीब आ गया तुम्हारी मृत्यु से मेरा क्या लेना देना मैं परम शिष्य की तलाश में अहंकार के बड़े रंग बड़े रूप है और अहंकार हर जगह भूल चूक खोज ही लेता है अहंकार भूल जो खोजता है उसका भीतरी अचेतन कारण है अपने लिए शांत बना खोजना तुम डरते हो कि अगर गुरु मिल ही गया तो फिर तुम्हें रूपांतरित होना पड़ेगा और मन तो रूपांतरित नहीं होना चाहता क्योंकि मन तो जीता है आत्तों में बंधी हुई यांत्रिकता में कम से कम प्रतिरोध उसका मार्ग है बदलाहट में तो बड़ी मुसीबत होगी सब बदलना पड़ेगा इसलिए अचेतन रास्ता खोजता रहता है कि नहीं ये भी गुरु नहीं ये भी गुरु नहीं ये भी गुरु नहीं ये भी ज्ञान नहीं इस तरह तुम अपने को सुरक्षित करते हो जब तुम कह देते हो कि ये गुरु नहीं है तो असली में तुम ये कह रहे हो कि शिष्य होने की झंझट से एक बार फिर बचे शिष्य होना बड़ी कठिन बात है इस संसार में उससे ज्यादा कठिन बात कोई भी नहीं क्योंकि शिष्य होने का अर्थ है कि हमने किसी और का सहारा पकड़ लिया और हमने सहारा बेसर्त पकड़ा पानी की आशा से नहीं प्रेम के भरोसे में पकड़ा कहीं पहुंच जाएंगे इस लोभ से नहीं किसी ने हमारे भीतर वीणा जगा दी किसी ने हमारे भीतर एक नए संगीत को जन्म दे दिया और हमारे पैर बंधे हुए उसके पीछे चलने लगे जैसे सांप नाचने लगता है बांसुरी को सुनकर ऐसा ही गुरु को देखकर सदगुरु को देखकर शिष्य अपना भान खो देता है अपनी अकड़ अपना होना खो देता है दूर की बांसुरी बजने लगी अज्ञात की पुकार आ गई बिना पूछे कहा जा रहा हूं कहा ले जा रहे हो क्योंकि बताए बताने का कोई उपाय नहीं पूछा कि बताने का कोई उपाय नहीं जाने से ही जाना जाता है होने से ही हुआ जाता है उस मंजिल के संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता तुम जाओगे जानोगे देखोगे तो ही श्रद्धा के किसी गहन क्षण में यात्रा शुरू होती है शिष्य की शिष्य का अर्थ है जो सीखने को तैयार है सीखने को तैयार कौन है सीखने को वही तैयार है जिसने ये अनुभव कर लिया कि अब तक अपने तई बहुत उपाय किए कुछ भी सीख ना पाया सीखने को वही तैयार है जिसने अपने अज्ञान की पीड़ा की प्रती कर ली सीखने को वही तैयार है जिसने देख लिया अपने हृदय के गहन अंधकार को सीखने को वही तैयार है जिसने देख लिया कि मैं अपने जीवन को सिर्फ उलझा रहा हूं सुलझा नहीं रहा पर जितना सुलझाने की कोशिश करता हूं बात और उलझती चली जाती है ऐसे पीड़ा के क्षण में ऐसी संताप की अवस्था में अपनी परिस्थिति को पूरा पूरा देखकर अपनी यात्रा की व्यर्थता को समझकर शिष्यत्व का जन्म होता है तब कोई सीखने को तैयार होता है और जो सीखने को तैयार है उसे अपनी अस्मिता और अहंकार को छोड़ देना पड़ता है क्योंकि अहंकार सीखने न देगा अहंकार बदलने न देगा अहंकार अपने से ऊपर किसी को रखने को कभी राजी ही नहीं है परमात्मा को भी करोड़ों लोग इंकार करते हैं सिर्फ इसी कारण इसलिए नहीं कि उन्हें पक्का पता है कि परमात्मा नहीं कैसे पता हो सकता है मेरे पास कभी कभी नास्तिक आ जाते हैं कहते हैं कोई परमात्मा नहीं मैं उनसे कहता हूं तुमने खोजा तुमने सब खोज डाला तुमने अस्तित्व के सब कोने कांतर देख डाले कुछ खोजने को जगह नहीं बची अगर सब देख डाला हो और परमात्मा को न पाया हो तब तो बात समझ में आती लेकिन खोजा कितना है जब तक तुम पूरे अस्तित्व को रखती रखती नाप ना डालो तब तक ये कहने का हक नहीं है कि परमात्मा नहीं क्योंकि जो हिस्सा शेष रह गया कौन जाने वहां हो और शेष तो बहुत बड़ा रह गया है जो जाना है वो तो ना कुछ है जो शेष है उसका तो कोई अंत नहीं इसलिए नास्तिक अक्सर सोचता है कि मैं तर्कयुक्त हूं लेकिन तर्कयुक्त होता नहीं यही तो सारा तर्क व्यर्थ हो गया बिना खोजे कहते हो नहीं है अंधापन है ये तो खोज लो फिर न पाओ तो कह देना लेकिन असली सवाल नास्तिक को खोजने का नहीं वो ये कह रहा है कोई परमात्मा नहीं इस कहने में वास्तविक क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि मेरे ऊपर किसी को मानने की मुझे सुविधा नहीं है और परमात्मा है तो मुझसे ऊपर कुछ है अहंकार इंकार करता है परमात्मा का अहंकार और परमात्मा के बीच गहन संघर्ष है या तो तुम अहंकार को बचा लो और या तुम परमात्मा को पालो दोनों तुम एक साथ न कर सकोगे और वैसी करने की कोशिश की तो सिर्फ विक्षिप्त हो जाओगे विमुक्त नहीं अल्लाह से इन सूत्रों में बड़ी गहन बातें कह रहा है पहली गहन बात तो वो ये कह रहा है कि सब संसार कहता है कि मेरा उपदेश ताओ मूर्ता से बहुत मिलता जुलता है क्योंकि यह महान है इसलिए यह मूर्ता से मिलता जुलता है क्षुद्र को तुम पहचानते हो महान से तुम्हारा कोई परिचय नहीं क्षुद्र की ही तुम्हारी भाषा है महान के साथ तुम्हारी भाषा एकदम अड़चन में पड़ जाती है या तो तुम मौन हो जाओ तो महान तुम्हारे भीतर छा जाए थोड़ा सा स्वास्थ्य तुम्हारी छाती में लगे अगर तुम बोलते ही चले जाओ तो महान की जो भी चर्चा है वो मूर्ता जैसी मालूम पड़ेगी इसलिए परम ज्ञानी अक्सर पागल मालूम हो रहे हैं और तुम्हारी भीड़ है अगर तुम ही तय करने वाले हो तो एक ज्ञानी की कौन सुनेगा तुम सब मताधिकारी हो तुम मत डाल सकते हो वोट डाल सकते हो और तय कर सकते हो कि आदमी पागल है क्योंकि ये जो बातें कह रहा है वो तुम्हारे मन से बड़ी है या तो तुम मन को छोड़ने को राजी हो तो इन बातों को समझ लो अगर तुम मन को ही पकड़ते हो तो ये बातें इतनी बड़ी ये ऐसे ही है जैसे कोई चुल्लू में सागर को भरने की कोशिश कर रहा हो या कोई मुट्ठी में आकाश को पकड़ने निकला हो और न पकड़ पाए तो कहे कि आकाश है ही नहीं महान बातों की एक कठिनाई है की महान बातें विरोधाभासी होती पैराडॉक्सिकल होती क्षुद्र बातें तर्कयुक्त होती है क्षुद्र बातों का तर्क बिल्कुल सीधा साफ होता है जितनी विराट होने लगती है बात उतनी ही अतर्क होने लगती है क्योंकि विराट अतर्क है सामान्य जीवन में रात अलग है दिन अलग है जन्म अलग है मृत्यु अलग है विराट में तो दोनों इकट्ठे हैं जन्म भी उसी में मृत्यु भी उसी में वहां तुम जन्म और मृत्यु को अलग अलग न रख पाओगे वहां तुम्हारे खंड करने की जो बुद्धिमत्ता है वो व्यर्थ हो जाएगी वहां तो अखंड का निवास है वहां तो मृत्यु में जन्म छिपा है जन्म में मृत्यु छिपी वहां तो मृत्यु भी जन्म का एक चेहरा है और जन्म भी मृत्यु का एक ढंग है वेश है वहां तो सब विरोध गिर जाते हैं और जहां विरोध गिर जाते हैं वहां मुश्किल हो जाती है उपनिषद कहते हैं ईश्वर पास से भी पास दूर से भी दूर तुम कहोगे ये पागलपन की बात या तो पास या दूर समझ में आता है अगर दूर है तो कहो दूर अगर पास है तो कहो पास लेकिन तुम दोनों कहते हो पास से भी पास दूर से भी दूर तो जो तर्कनिष्ठ मन है वो दुविधा में पड़ जाता है करो क्या तर्कनिष्ठ मन कहता है जो चीज दूर होती वो दूर होती जो पास होती वो पास होती और दोनों तो कैसे हो सकती है लेकिन परमात्मा ऐसा ही है पास से भी पास दूर से भी दूर और जिन्होंने जाना है उनकी मजबूरी है वो भी चाहते हैं कि तुम्हारी भाषा में बोल दे लेकिन तब जो वो बोलते हैं वो परमात्मा के प्रति अन्याय हो जाता है अगर तुम्हें तुम्हारी भाषा में बोले तो परमात्मा के प्रति अन्याय होता है अगर परमात्मा जैसा है वैसा ही बोले तुम्हारी भाषा के कटघरे टूट जाते हैं उपनिषद ठीक ही कहते हैं क्योंकि वो पास से भी पास है उससे ज्यादा पास कोई भी नहीं तुम भी अपने उतने पास नहीं जितने वो तुम्हारे पास है क्योंकि तुम्हारे हृदय की धड़कन वही है कबीर ने कहा सब सांसों की सांस में तेरा साई तुझ में वो तुझ में ही छिपा है अगर ठीक से कहें तो तेरा होना उस साई का ही होना है दूरी तो दूर पास कहना भी बहुत दूर कहना है पास भी कहना ठीक नहीं क्योंकि पास में भी थोड़ी तो दूरी होती ही है तुम मेरे पास बैठे हो लेकिन फासला तो है तुम और पास आ जाओ फासला कम हो जाएगा रहेगा तो तुम बिल्कुल आके मेरे गले से मिल जाओ फासला ना के बराबर हो जाएगा लेकिन ना के बराबर भी फासला तो है ही पास भी तो दूर ही है परमात्मा पास से पास है ये परम सत्य है लेकिन फिर तुम्हें मिल क्यों नहीं रहा है अगर इतना पास है तो मिल ही जाना चाहिए था अगर इतना पास है तो खोने का उपाय ही कहां था अगर इतना पास है तो अब तक भटकन क्यों है इसलिए ज्ञानी कहते हैं दूर से भी दूर अगर इसको हम और सुलझा के कहना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि परमात्मा तो तुम्हारे बहुत पास है तुम परमात्मा से बहुत दूर मगर वो भी अतर्क है क्योंकि तुम कहोगे जब परमात्मा हमारे पास है तो हम भी उसके पास है परमात्मा तो तुम्हारे पास है तुम्हारे भीतर है तुम हो लेकिन तुम परमात्मा से बहुत दूर हो तुम परमात्मा के भीतर नहीं हो तुम्हारा फासला अनंत है अतर्क हो जाती है जितनी होती है विराट बात और जब अतर्क हो जाती है तो तर्क निश्चय मन कहता है ये तो मूर्खता की बात है और लाओस से जैसा मूर्ख तुम न पा सकोगे सब उपनिषदों को हरा देता है लाश उस जैसा पेराडॉक्सिकल उस जैसा विरोधाभासी कभी कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं मैं उसे हराने की कोशिश कर रहा हूं सफलता मुश्किल कोई उपाय नहीं दिखता लाओ से ज्यादा विरोधाभासी होने की जगह नहीं बची तुम पूछो लाओ से कैसे पाएंगे परमात्मा को वो कहता पाने की कोशिश की कि खोदोगे भूल के भी कोशिश मत करना कोशिश नहीं तो लोग भटक गए जो मिला ही हुआ है उसे कहीं कोशिश करके कोई पाता है तुम फिर भी पूछोगे फिर क्या करें कहता किया कि चूके पाने का ढंग है न खोजना लाओ से कहता पाने का ढंग है न खोजना खोजना ही नहीं लाओ से कहता है उसकी तरफ जाने का ढंग है बैठ रहना उठना ही मत चले कि भटके चले कि दूर निकले वो तो पास था तुम चल के कहा जा रहे हो शरीर ही न बैठ जाए मन भी बैठ जाए तुम्हारे भीतर कोई गति ही न रह जाए और तुम उसे पालोगे पालोगे कहना ठीक नहीं है तुम अचानक हंसोगे और कहोगे जिसने सदा से पाया हुआ था उसे खोया कैसे था ये अनहोनी घटी कैसे ये चमत्कार कैसे संभव हुआ कि जो भीतर जाग रहा था जो खोजने वाले में छिपा था जो खोजी का हृदय था उसको हम चुप कैसे गए अगर और ठीक से समझना चाहो तो लाओ से ये कहता है कि वो पास है इसलिए तुम्हें दूर मालूम पड़ता वो पास है इसलिए तुम चुग गए हो जैसे सागर की मछली चुग जाती सागर को उसे पता ही नहीं चलता कि सागर कहाँ है पता चलेगी अभी कैसे पता चलने के लिए थोड़ी दूरी चाहिए मछली सागर में ही पैदा होती सागर में ही जवान होती सागर में ही जीती सागर में ही मर जाती है मछली को पता कैसे चलेगा कि सागर है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई मछुआ मछली को पकड़ लेता कोई मछुआ जाल में फांस लेता है कोई मछुआ सागर से उठा लेता है दूर मछली को तट पर पटक देता है तब मछली को पहली बार पता चलता है कि सागर क्या है खोकर पता चलता है कि क्या है होकर पता नहीं चलता लेकिन परमात्मा के साथ और भी अड़चन है उसका कोई किनारा नहीं और बहुत मछुओं ने जाल डाले मैं भी वही कर रहा हूं मछलियां फंस भी जाएं तो भी उन्हें किनारे पर पटकने का कोई उपाय नहीं किनारा ही नहीं परमात्मा तटहीन सागर है इसलिए तुम उसे जान नहीं पा रहे क्योंकि वो बहुत गरीब है तुम उसे जान नहीं पा रहे क्योंकि वो तुम नहीं ही छिपा है कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए छिपी है वास भीतर और मृग पागल हो जाता है और खोजता है जंगल में दूर दूर लहु लुहान हो जाता है टकराता है बांधता है सुगंध कहीं से आती मालूम पड़ती लगता है कहीं कोई प्रगाढ़ आकर्षण खींचे ले रहा है कोई चुंबकीय शक्ति है और कस्तूरी भीतर और कस्तूरी मृग की नाभि में छिपी पक गया है नाफा गंध बाहर आ रही तुम परमात्मा को खोजते फिरते हो जगह जगह काशी कैलाश काबा और कस्तूरी कुंडल बसे जो गंध तुम्हें मिल रही है जीवन की वो तुम्हारे भीतर से आ रही है लेकिन बाहर की प्रतिध्वनि तुम्हें सुनाई पड़ती है यूनान में एक कथा है एक बहुत सुंदर युवक हुआ नारसी सर वो इतना सुंदर था कि वो अपने ही प्रेम में पड़ गया उसने अपनी छाया देख ली एक सरोवर में तब दर्पण न रहे होंगे बहुत पुरानी कथा है एक सरोवर में अपनी छाए देख ली इतनी सुंदर थी निश्चित ही युवक बहुत सुंदर था फिर बहुत युवतियों ने उस पर अपने तीर फेंके वो कारगर न हो सकी क्योंकि वो जो छाव में उसने देख लिया था वैसा सुंदर फिर उसने किसी को पाया नहीं वो भटकता रहा वो खोजता रहा उस व्यक्ति को जो जो उसने देख लिया था सरोवर की के भीतर छिपा हुआ वो घंटों और दिनों और महीनों सरोवर के किनारे बैठा रहता और देखता रहता टकटकी लगा के पानी में छलांग लगाता प्रतिबिंब खो जाता डुबकी मारता खोजता कुछ भी ना पाता वहां कुछ था तो नहीं वहां तो बस प्रतिफलन था वहां तो सिर्फ प्रति छाया थी उसके कुंभ ही खो जाती कहते हैं नास्ती सब पागल हो गया सरोवर दर्पण प्रतिफलन छलांग लगाना खोजना खाना पीना भूल गया जंगल जंगल खोजता फिरा पहाड़ पहाड़ उसकी आवाज से गूंजने लगे जो नार्सिसस की कथा है वही तुम्हारी कथा है तुम जिसे खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर छिपा है हो सकता है किसी के आंख की सरोवर में तुम्हें दिखाई पड़ा हो अपना प्रतिबिंब हो सकता है किसी के चेहरे पर तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ा हो हो सकता है कभी संगीत के माधुरी में झलक गई हो बात किसी सुबह सूरज के उगते क्षण में आकाश के मौन में पक्षियों के कलरों में खिलते हुए गुलाब के फूल में तुम्हें दर्पण मिल गया हो लेकिन जो तुमने देखा है जो तुमने सुना है जो तुमने पाया है कहीं भी बाहर सब खोजियों की खोज एक है कि वो तुम्हारे भीतर छिपा है लाओस से पूछो कहा खोजे वो कहता कहीं भी खोजा तो मुश्किल में पड़ोगे खोजो मत रुक जाओ बिल्कुल रुक जाओ और तुम पालोगे निष्क्रियता है राज पाने का लाओस से कहता है मिट जाओ तो हो जाओगे अगर बने रहे तो मिटोगे बुरी तरह मिटोगे लाओस से कहता है अगर सफल होना हो तो सफल होने की कामना ही छोड़ देना अगर तृप्ति चाहिए हो तो तृप्त होने की वासना ही मत रखना सब कामनाएं भरपूर हो जाती है जैसे ही कामना छूट जाती मेरे वासना से भरे मन में वो परम गोह उतर आता है उस परम गोह का नर्तन शुरू हो जाता है गिर जाते हैं मेघ आनंद के उसके पास जिसकी कोई चाह नहीं तुम्हारी मुसीबत यह है कि तुम कहते हो चाह नहीं हम तो लाओसे के पास भी इसलिए जाते हैं कि चाह है लाओसे की बात भी तुम इसलिए सुनते हो कि सोचते हो शायद इसकी बात सुनने से आनंद मिल जाए तुम ज्ञानियों के पास भी अपने लोभ के कारण जाते हो और ज्ञानी ये कह रहा है तुम हमारे पास आ सकोगे तभी जब तुम्हारे पास कोई लोभ ना हो बड़ी अड़चन है गुरु और शिष्य के बीच बड़ा गहन संघर्ष है उससे बड़ा कोई युद्ध संसार में नहीं और अगर शिष्य जीत जाए तो वही उसकी हार होगी और शिष्य अगर हार जाए तो वही उसकी जीत होगी अब ये सब विरोधाभास है और जब लाओ से ने ये सब बातें कही और अपने ताओ से किंग का पहला वचन कहा कि जो कहा जा सके वो सत्य है ही नहीं और फिर कहना शुरू किया तो अगर लोगों ने समझा कि इस लाओसे का उपदेश मूर्ता से बहुत मिलता जुलता है तो कुछ हैरानी की बात नहीं तुम ही थे वे लोग कुछ बदलता नहीं नाटक की मंच बदल जाती है वही है अभिनेता वही है दर्शक कथा वही है जिससे रामलीला चलती है हर गांव में चलती है कथा वही है मंच अलग है राम भी अलग रूप के सीता भी अलग रूप की है कथा वही है सार वही है जो से के साथ तुमने किया वही तुम मेरे साथ करोगे जो से तुम्हारे साथ करना चाहता था वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ कथा वही है हर गुरु शिष्य के बीच कथा वही है उसमें कुछ बहुत भेद नहीं है रूप का भेद है रंग का भेद नाम का भेद भीतर की धारा एक है तुम्हें मेरी बातें मूर्ता जैसी ही लगेंगी तुम अगर मेरे प्रेम में पड़ गए तो शायद तुम कहो ना लेकिन भीतर कहीं तुम्हारा तर्क कसमसाता रहेगा और कहता रहेगा इन बातों में कहा पड़ेगा मन इन बातों को समझ नहीं सकता लाओस से कहता है क्योंकि यह महान है यह उपदेश इसलिए यह मूर्ता से मिलता जुलता है ये थोड़ा समझ लेने जैसा है क्योंकि ज्ञानी करीब करीब एक अर्थ में मूल जैसा हो जाता है वर्तुल पूरा हो जाता है तुमने कभी किसी मूढ़ व्यक्ति को देखा है मूर्खों की बात नहीं कर रहा हूं मूढ़ मूढ़ का मतलब होता है इडियट जो सोच ही नहीं सकता ज्ञानी का भी सोचना खो जाता है फर्क बड़ा है तालमेल भी बड़ा है अगर तुम इतना ही देखो तो जिसको हम मूल कहते हैं उसमें भी विचार की तरंगे नहीं होती वो बैठा रहता सुस्त पत्थर की तरह उसके भीतर कोई उहापोह नहीं होता ज्ञानी भी बैठा रहता है लेकिन पत्थर की तरह नहीं बड़ा गतिमान बड़ा प्रवाहमान सतत धारा बहती है चैतन्य की लेकिन विचार नहीं होता तो अगर तुम विचार से ही नापने चलो तो तुम्हें ज्ञानी और मूल समान मालूम पड़ेंगे अगर तुम चैतन्य से नापने चलो तो वो तो विपरीत छोर है मूल के पास कोई चैतन्य नहीं है ज्ञानी के पास परम चैतन्य मूल विचार से नीचे है ज्ञानी विचार के ऊपर लेकिन दोनों के विचार मध्य में तुम हो जहां विचारों का झंझावात है तुमसे नीचे है मूल वहां कोई झंझावात नहीं इसलिए मूड भी कभी कभी बड़ा प्रसन्न दिखता है मूड तुमसे ज्यादा आनंदित दिखता है क्योंकि न कोई चिंता है न कोई विचार है मूल जानवर जैसा है वो तुमसे ज्यादा सुखी है इसमें कोई शक नहीं क्योंकि दुखी होने के लिए काफी चिंतन की जरूरत है दुखी होने के लिए काफी विचार करना जरूरी है जितना विचारशील आदमी हो उतना दुख का जाल खड़ा कर लेता है संतों ने कहा है सबसे भले मूड जिन्होंने व्यापे जगत रखी जगत चलता रहता है मगर मूल में व्याप्ति नहीं कुछ बात उसमें कुछ मतलब ही नहीं है खा लिया पी लिया सो गए ज्ञानी भी ऐसा ही है खा लिया पी लिया सो गए लेकिन मूल है अंधकार से भरा और ज्ञानी है प्रकाश से भरा मूल में विचार नहीं उठते क्योंकि प्रकाश की जरा सी भी झलक नहीं ज्ञानी में विचार नहीं उठते क्योंकि प्रकाश परिपूर्ण हो गया अंधकार का जरा सा भी कोना नहीं रह गया मूल अंधकार की दृष्टि से पूर्ण है ज्ञानी प्रकाश की दृष्टि से पूर्ण है तुम मध्य में हो इसलिए तुम्हारी बड़ी दुर्गति है मध्य में सदा दुर्गति रहेगी क्योंकि खिंचाव रहेगा तनाव रहेगा एक तरफ मूर्ता खींचती है कि चले आओ इसी किनारे क्यों परेशान हो रहे तो कभी कभी तुम शराब पी के मूल हो जाते इसलिए तो दुनिया में नशों का इतना प्रभाव वो मूल होने के दंग मूर्ता खींचती है लौट आओ पुराने किनारे पर इस मध्य में खड़े खड़े तुम बहुत परेशान अशांत बेचैन हो रहे हो लेकिन कोई पीछे लौट नहीं सकता जीवन में पीछे जाने का उपाय नहीं है इसलिए तुम घड़ी दो घड़ी के लिए लौट जाओ फिर वापस लौट आना पड़ेगा उपाय तो आगे जाने का है ज्ञानी बुलाते हैं आगे बढ़ाओ ज्ञानी भी कहते हैं मत रुको सेतु पर अकबर ने फतेहपुर सिकड़ी बनाई नई बत्ती थी नई राजधानी थी बड़ी मेहनत से बनाई गई थी अरबों रुपए खर्च किए गए थे फिर अकबर ने अपने पंडितों को अपने दरबारियों को अपने नवरत्नों को कहा कि कोई एक वचन खोजो दुनिया के साहित्य जो इस फतेहपुर सीकरी के दरवाजे पर लिखा जा सके बड़ा बहुमूल्य वचन लोगों ने खोजा वो वचन है जीसस का वचन का अर्थ है जो सतत उस सीकरी के द्वार पर खुदा है कि ये संसार एक सेतु है इस पर गुजर जाओ इस पर घर मत बना this world is like a bridge pass through it go beyond it but don't make your house on it सेतु का अर्थ होता है दो किनारों के मध्य में सेतु पर जो है उसमें हमेशा तनाव होगा तुम जिस अवस्था में हो वो अवस्था नहीं है वो एक बीमारी है इसलिए तो तुम बेचैन मनुष्य सदा बेचैन रहेगा पशु बेचैन नहीं परमात्मा बेचैन नहीं मनुष्य बेचैनी है मनुष्य एक गहन संताप है रहेगा ही क्योंकि दो अतियां उसे खींच रही है या तो गिर जाओ और बन जाओ बस कभी संभोग में कभी शराब में वही घटना घटती है गिर जाते हो वापस थोड़ी देर के लिए पशुओं के जगत में लीन हो जाते हो थोड़ी देर को शांति मिलती है और वो थोड़ी देर को ही हो सकता है क्षण इसलिए तो तुम्हारे सारे सुख क्षण भंगुर है क्षणभंगुर का इतना ही मतलब है कि जब तुम मूल होते हो तभी तुम्हें सुख मिलता है और मूलता तुम क्षण भर को ही संभाल सकते हो और उसके लिए भी तुम्हारे शरीर की केमिस्ट्री का बदला जाना जरूरी है सेक्स में भी बदल जाती है खूब भोजन कर लेते हो तब भी बदल जाती है शरीर की रसायन शराब पी लेते हो एलएसडी ले लेते हो तब भी बदल जाती है शरीर की रसायन शरीर की रसायन बदल जाए तो तुम थोड़ी देर के लिए पशु हो पाते हो फिर से तब ये अंधी मूर्ख प्रकृति के तुम हिस्से हो जाते मूर्छित हो जाओ तो तुम मूल जैसे हो जाते हो सजग हो जाओ तो संतत्व उपलब्ध होता है संतत्व में फिर कोई विचार नहीं यात्रा समाप्त हो गई मूल के पास भी कोई विचार नहीं है यात्रा भी शुरू ही नहीं हुई मूल एक तरह की शून्यता है अभाव संतत्व एक तरह की पूर्णता है दोनों की एक खूबी है कि दोनों पूर्ण है मूल अपनी मूर्ता में संत अपनी पूर्णता में पर दोनों पूर्ण है इसलिए सांसारिक लोगों को अक्सर संत या तो विक्षिप्त मालूम पड़ते हैं या मूल मालूम पड़ते हैं इस सूत्र को ख्याल में ले लो या तो तुम्हारी चेतना पूरी अंधकार में डूब जाए तुम बिल्कुल अचेतन हो जाओ तो तुम्हें सुख मिल सकेगा या तुम्हारी पूरी चेतना चैतन्य हो जाए सब अचेतनता मिट जाए सब मूर्छा टूट जाए सब बेहोशी गिर जाए तुम एक जलती हुई ज्योति बन जाओ परम चैतन्य की तब तुम आनंद में लीन हो सकोगे और ध्यान रखना पीछे लौटने का कोई भी उपाय नहीं कितनी ही कोशिश करो पीछे लौटना ऐसा ही है जैसे कोई आदमी जमीन पर खड़े होकर छलांग लगाए एक क्षण को हवा में उठ जाता है दूसरे क्षण वापस जमीन पर आ जाता है तुम्हारे चित्त की दशा से तुम पीछे नहीं जा सकते प्रकृति पीछे जानने को मानती ही नहीं जानती ही नहीं जवान कैसे बच्चा होगा बूढ़ा कैसे जवान होगा पीछे लौटना तो नहीं होता आगे ही जाना है जीवन एक विकास है जीवन एक सतत विकास है परमात्मा पर पूर्ण होती है सब संसार कहता है मेरा उपदेश मूर्ता से मिलता जुलता है क्योंकि यह महान है इसलिए यह मूर्ता से मिलता जुलता है All the world says my teaching greatly resembles folly because it is great. Therefore it resembles folly. और यदि मूर्ता जैसा न लगता तो यह सब कब का तुच्छ हो गया होता If it didn't resemble folly, it would have long ago become petty indeed. और ये महान है और सदा ही ऐसा लगता रहेगा अगर ये महान न होता तो कभी का तुच्छ हो गया होता इसे भी थोड़ा समझ लें महान शिक्षाएं सदा ताजी क्यों रहती तुम उन्हें बात ही नहीं कर पाते बुद्ध को गए 2500 साल हो गए लाओसे को गए कि 2500 साल हो गए 2500 साल समय जरा से भी धूल उनके ऊपर नहीं जमा पाया है पच्चीस सौ साल न मालूम कितने सम्राट आए और गए कितने युद्ध हुए कितनी क्रांतियां हुई समाज बदला जीवन के ढंग सभ्यता संस्कृति बदली आज कुछ भी तो वैसा नहीं है जैसा से के समय में था लेकिन लाहौल से बिल्कुल वैसा का रहे ऐसा ताजा जैसे सुबह की ओस अभी अभी खिला फूल हो सभ्य स्नान अभी अभी स्नान करके आया हो समय धूल नहीं जमा पाता महान सिद्धांतों पर छोटे सिद्धांत सामयिक होते महान सिद्धांत शाश्वत होते हैं सनातन होते छोटे छोटे सिद्धांत आते हैं चले जाते हैं महान सिद्धांत ना तो आते हैं और न जाते हैं जो लाओस से कह रहा है वो लाओस से के पहले भी मौजूद था लाओस से ने फिर से उसे वाणी की जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो सदा से मौजूद रहा है मैं उसे फिर से वाणी दे रहा हूँ न लाओस से का इसमें कुछ न मेरा इसमें कुछ महान शिक्षाएं शाश्वत है सनातन है उन्हें कोई लाया नहीं उन्हें कोई ले जा नहीं सकता हाँ इतना ही हो सकता है जब कोई व्यक्ति मौजूद होता है जो अपने हृदय को माध्यम बना दे जो अपने प्राणों को बांसुरी बना दे तो वो शिक्षाएं फिर से अनगूंज उठा देती फिर से गीत गुनगुनाने लगती शिक्षाएं सदा मौजूद रहती उस व्यक्ति की तलाश में रहती जो अपने को खुला छोड़ दे और शिक्षाएं उससे बह जाए धर्म किसी की बकौती नहीं है इसलिए तो मैं कहता हूँ धर्म न तो हिंदू है न मुसलमान है न ईसाई है न जैन है न बौद्ध धर्म तो सनातन है कभी क्राइस्ट के होठों से बांसुरी ने गीत गाया इससे गीत ईसाई नहीं हो गया गाने वाला वही एक है कभी लाओसे के ओठों पर स्वर गूंजे गीत ओठों के कारण भिन्न नहीं हो गया कभी महावीर कभी बुद्ध कभी कृष्ण रूप बदलते हैं अभिव्यक्ति बदल जाती है लेकिन सार आत्मा वही है इसे ख्याल में रखो क्योंकि ईसाई बन जाना बहुत सरल है धार्मिक बनना बहुत कठिन हिंदू बनना एकदम आसान है मुफ्त कुछ करना ही नहीं पड़ता संयोग की बात हिंदू घर में पैदा हो गए हिंदू बन गए धार्मिक बनना बड़ी क्रांति और जो सस्ते से राजी हो जाता है वो बहुमूल्य से वंचित रह जाता है सस्ते से राजी मत होना हिंदू होना इतना आसान नहीं है न मुसलमान होना इतना आसान है न ईसाई होना इतना आसान है जितना तुमने समझ रखा है पैदा हो गए ईसाई धर्म ईसाई हो गए पैदाइश से धर्म का क्या संबंध है धर्म से तो संबंध जन्म मृत्यु का है ही नहीं धर्म तो वही है जिसका कोई जन्म नहीं हुआ और जिसकी कभी कोई मृत्यु नहीं होगी तुम अपने जन्म मृत्यु से धर्म को क्यों छोड़ रहे हो धार्मिक होना व्यक्ति का बड़े सचेतन अवस्था में लिया गया निर्णय जन्म नहीं तुम्हें खोजना होगा तुम्हें उठना होगा अपनी तंद्रा से तुम्हें जागना होगा जाग कर ही तुम धार्मिक हो सकोगे सोए सोए तुम हिंदू बने रहो मुसलमान बने रहो ईसाई बने रहो कुछ फर्क न पड़ेगा मंदिर मस्जिदों में लोग सो रहे हैं संप्रदाय एक तरह की कहन दिख रहा है जागना हो तो तुम्हें सनातन की खोज करनी पड़ेगी हाँ जिस दिन तुम सनातन को समझ लोगे उस दिन तुम्हें उस सनातन की प्रतिध्वनिया मंदिरों मस्जिदों में गिरजाघरों में गुरुद्वारों में सब जगह सुनाई पड़ने लगेगी संप्रदाय से कोई कभी धर्म तक नहीं पहुंचता लेकिन जो धार्मिक हो जाता है उसकी समझ में सब संप्रदाय आ जाते शास्त्र से कोई कभी सत्य तक नहीं पहुंचता लेकिन जिसने सत्य का जरा सभी स्वाद चख लिया सभी शास्त्रों में वही स्वाद अनुभव होने लगता है तुम्हें गवाही बनना है धार्मिक होकर ही तुम गवाही बन सकोगे धार्मिक होते ही सारे शास्त्र तुम्हारी गवाही पर सच होंगे तुम कहोगे इसलिए सच होंगे एक व्यक्ति भी धार्मिक हो जाए तो कृष्ण खाई बुद्ध लाओ से महावीर सभी उस व्यक्ति के माध्यम से फिर पुनः अवतरित हो जाते हैं क्योंकि फिर से वो व्यक्ति उस अज्ञात को खींचकर तुम्हारी पृथ्वी के अंधकार पूर्ण कोने में ले आता है फिर से उन स्वरों को गुजा देता है जो खो गए मालूम पड़ते थे लाओस से कहता है और यदि मूर्ता जैसा नहीं लगता तो महान सिद्धांत सदा ही मूर्ता जैसे लगेंगे और महान सिद्धांतों की यात्रा पर केवल वे ही लोग जा सकते हैं जिन्हें मूल होने की हिम्मत है तुम अगर बहुत बुद्धिमान हो तब तुम क्षुद्र से ही तुम्हें संतुष्ट होना पड़ेगा बहुत बुद्धिमानों से मूल तुम कहीं भी ना खो सकोगे ज्यादा बुद्धिमानी मत दिखना अन्यथा बुद्धिमत्ता से चूक जाओगे पहली बुद्धिमानी तो मूल होने की हिम्मत है अज्ञानी होने का साहस ज्ञान की तरफ पहला चरण है तुम किसको धोखा दे रहे हो तुमने थोड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया है कहीं से सुने तब बाजार में सुनी बातें माँ बाप के उपदेश स्कूल के शिक्षकों की चर्चा वो सब तुमने इकट्ठी कर ली लेकिन उसका कोई भी मूल्य नहीं है मूल्य नसुद्दीन ने किस स्कूल में शिक्षक था और जैसा कि स्कूल में शिक्षकों की आदत होती वो अखबार लेके सांस बंद करके काम करता था लड़के उसे कई दफा सोए हुए पकड़ लेते थे आज लड़कों ने एक दफा कहा कि आप हमें तो सोने नहीं देते घबराहट लेते उसने कहा मैं घबराहट नहीं लेता तुम तो सब काम में लगे हो उस बीच में स्वर्ग की यात्रा कर जाता वहां देवी देवताओं से मिलता हूँ भगवान के दर्शन करता हूँ वहीं से तो ज्ञान लाता हूँ तुम्हारे लिए रोज रोज से मुला रसुद्दीन बीच में जग गया एक मक्खी उसके ऊपर भिंगला रही थी उसने देखा एक सामने ही बैठा लड़का घुर्राटे ले रहा उसने जगाया अब लड़के भी कुशल हो गए थे लोग सीख लेते अगर गुरु जब इतना ज्ञानी तो लड़के भी ज्ञानी हो गए उस लड़के ने कहा आप ये मत समझना कि मैं कोई सो रहा था मैं स्वर्ग गया था नसरुद्दीन थोड़ा चिंतित हुआ उसने कहा कि वहां क्या देखा उसने कहा क्या देखा मैंने सब देवी देवताओं से पूछा कि मुल्ला नसरुद्दीन नजर आते उन्होंने कहा हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना न गुरु जानते न माँ बाप को कुछ पता कोई भी उस स्वर्ग में गए नहीं कोई उस मोक्ष को जाना नहीं और वो तुम्हें सिखा रहे हर बच्चे को भी सिखा रहे मैं छोटा था तो मुझे ले जाया जाता था मंदिर झुको मैं पूछता कि अगर आपको पता हो पक्का तो मैं झुकने को राजी हूं मुझे आप पे भरोसा लेकिन मुझे शक है कि आपको पता नहीं मुझे लगता है कि आपके माँ बाप ने आपको झुकाया आप मुझे झुका देते अगर आपको पक्का पता हो तो मैं भरोसे में छपने को राजी हूं मेरे पिता ईमानदार आदमी उन्होंने मुझे कहा तो फिर हम ही झुकते तुम मत झुको क्योंकि हमारी तो आदत हो गई और न झुकने से बड़ी अड़चन होगी अब तुम अपना संभालो मगर इस तरह के कठिन सवाल मत उठाओ माँ बाप से सीख लिया है स्कूल में सीख लिया है किताबों में लिखा है सब तरफ प्रचार हो रहा है उससे सीख लिया है उसको तुम ज्ञान समझ रहे हो किसको धोखा दे रहे हो खुद ही धोखा खा रहे हो एक पंडित एक गांव की यात्रा पर गया था बड़ा पंडित था छोटी सी घोड़ा गाड़ी में गांव पर किसान से ले जा रहा तो था गांव में कोई यज्ञ होने को था एक मक्खी घोड़े के आसपास सिर के चक्कर काटती और कभी कभी पंडित के सिर के पास भी चक्कर काटते पंडित बकवासी था जैसे कि पंडित होते लंबा रास्ता था तो कुछ बातचीत चलाने के उसने कहा देहाती से क्यों रहे मुझे उस देहाती बंगाली को हाँक रहा इस मक्खी का क्या नाम है पंडितों की उत्सुकता नाम नहीं रहती भगवान का क्या नाम मक्खी का क्या नाम उस गांव के गवाह ने कहा कि इसका नाम घुड़ मक्खी घुड़ मक्खी मक्खी का क्या मतलब होता तो उस गांव के गवाह ने कहा कि ये घोड़े खच्चर गधे उनके सिर के आसपास चलते इसलिए इसका नाम गुणमक्खी उस पंडित ने कहा क्या तेरा मतलब कि मैं घोड़ा हूं उस ग्रामीण ने कहा कि नहीं आप घोड़ा बिल्कुल नहीं घोड़ा जिससे लगते भी नहीं तो उस पंडित को और थोड़ी बेचने हुई उसने कहा क्या मतलब तू मुझे खच्चर समझ उसने कहा कि नहीं खच्चर भी आप नहीं आपके चेहरे से साफ आप खच्चर भी नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं तो पंडित जी आप तो एक ही विकल्प क्या तुम मुझे गधा समझते उस ग्रामीण ने पंडित को नीचे से ऊपर तक कई बार देखा और कहा कि नहीं गधा भी आप नहीं है और गधे जैसे लगते भी नहीं है लेकिन गुड़मक्खी को धोखा देना मुश्किल धोखा किसको दे रहे हो घुड़मक्खी तक को धोखा देना मुश्किल है तुम परमात्मा को अस्तित्व को धोखा देने चले तुम्हारा पांडित्य दो कोने का है जितने जल्दी कचरे घर पर रखा हो उतना अच्छा है लाओ से कहता है कि अगर मूलों को ये परम सिद्धांत मूर्ता जैसे न लगते तो वे कभी के तुच्छ हो गए होते उनकी ताजगी है कि आज भी लाव से को तो समझने में उतनी ही अड़चन है जितनी कभी पहले थी लाओस से अब भी उतना ही बेबूज जितना कभी तो लाओस से सदा बेबूज रहेगा क्योंकि वो जिस सत्य की बात कर रहा है सत्य का स्वभाव बेबूज सत्य का स्वभाव रहस्य जिन्होंने अपने अज्ञान को समझ लिया वे तो शायद उसे समझने को तैयार हो जाए लेकिन जिन्होंने अपने अज्ञान को ज्ञान समझाया उनके लिए उसका मूर्ता जैसा ही रहेगा लाओस से कहता है मेरे तीन खजाने ये लाओस से की शिक्षाओं का सार है निचोड़ है नवनीत है मेरे तीन खजाने हैं उन पर पहना दो और उन्हें सुरक्षित रखो पहला है प्रेम दूसरा है अति कभी नहीं तीसरा है संसार में प्रथम कभी मत हो I have three treasures guard them and keep them safe first is love the second is never too much the third is never be the first in the world प्रेम मैं उससे प्रार्थना नहीं कहता क्योंकि प्रार्थना तो तुम अभी कर ही ना सकोगे अभी तो तुमने प्रेम ही नहीं किया अभी तो प्रार्थना बड़ी दूर की बात हो जाएगी और अभी तुम प्रार्थना अगर करोगे बिना प्रेम किए तो झूठी हो जाएगी प्रार्थना क्योंकि प्रार्थना का सारा शब्द तो प्रेम से आता है मेरे पास लोग आते वो कहते ऐसा नहीं है कोई उपाय कि प्रेम को बचा के और हम सीधे प्रार्थना में चले जाते तुम प्रार्थना में जाओगे कैसे प्रेम को बचा के प्रेम कोई सीढ़ी होती तो हम सलाम भी लगा लेते प्रेम सीढ़ी नहीं है प्रार्थना का प्राण अगर प्रेम कोई सीढ़ी होती तो छलांग लगा के एक दूसरे सीढ़ी पर सीधे चले जाते हैं लेकिन प्रेम सीढ़ी नहीं है प्रेम प्रार्थना का सार दूत प्राण है और जब प्रेम से ही तुम बचना चाहते हो तो तुम प्रार्थना से से भी बचना चाहोगे हालांकि प्रार्थना में धोखा देना आसान है प्रेम में धोखा देना मुश्किल इसलिए इसलिए लोग पूछते हैं कि प्रेम से बचने का कोई उपाय नहीं प्रार्थना तुम मंदिर में करते हो लेकिन तुम प्रार्थना को सीखोगे कहा उसका स्वाद तुम्हें कहा मिलेगा अगर तुमने जीवन में प्रेम जाना हो तो मंदिर के द्वार खुलेंगे क्योंकि जीवन में जिसने प्रेम को जाना वो आज नहीं कल मंदिर के द्वार पर दस्तक देगा क्योंकि जब प्रेम में इतना रस पाएगा तो प्रार्थना में कितना रस न मिलेगा प्रेम ही तो खींचेगा जब एक बूंद पाके इतना मिल गया तो सागर में कितना ना मिलेगा प्रेम अगर बूंद है बिंदु है तो प्रार्थना सागर है सिंधु है और प्रेम उपलब्ध है और प्रेम के लिए कोई थियोलॉजी कोई धर्मशास्त्र की जरूरत नहीं और प्रेम के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं प्रेम तो परमात्मा ने तुम्हें दिया ही है परमात्मा की महान अनुकंपा है तो उसने तुम्हें सारभूत दिया है जिसको अगर तुम खोल लो तो उसी से तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा तुम्हारे पास उपकरण है जीसस का बड़ा प्रसिद्ध वचन है love and through love you will know God because love is God प्रेम करो प्रेम से तुम परमात्मा को जानोगे क्योंकि परमात्मा प्रेम है यह बड़ी बारीक बात है जीसस ने ये नहीं कहा love God so that you can know God Jesus ने ये नहीं कहा कि परमात्मा को प्रेम करो ताकि तुम परमात्मा को जान सको तो जीसस ने कहा love and you will know God प्रेम करो और तुम परमात्मा को जान लोगे क्योंकि परमात्मा प्रेम है इसलिए थोड़ी देर को परमात्मा को भूल जाए प्रेम को ही समझ लें कि प्रेम क्या है उसी समझ में धीरे धीरे प्रार्थना भी प्रकट होनी शुरू हो जाती प्रेम की प्रगाढ़ता प्रार्थना बन जाती है प्रेम है दो व्यक्तियों का मिलन प्रेम है ऐसा क्षण जहाँ दो व्यक्ति अपने अहंकार को अलग कर देते जहाँ दो व्यक्ति अहंकार को बीच में लेकर नहीं मिलते अहंकार को हटा के मिलते प्रेम से समर्पण दो व्यक्तियों का एक दूसरे के प्रति प्रेम है भरोसा प्रेम है इस भांति की व्यवस्था कि देह तो दो होंगी लेकिन आत्मा एक होगी और प्रेम प्रशिक्षण अगर तुमने प्रेम ही नहीं किया और तुमने हजारों उपाय कर लिए ताकि तुम प्रेम ना कर सको विवाह तुमने ईजाद कर लिया प्रेम से बचने को जैसे संप्रदाय ईजाद किए धर्म से बचने को ऐसा विवाह ईजाद किया प्रेम से बचने को प्रेम को काट ही दिया है इसलिए तो होशियार होमे चालाक होमे बच्चों को प्रेम नहीं करने लिए माँ बाप तय करते माँ बाप के तय करने में प्रेम को छोड़कर और सभी चीजों का विचार किया जाता है धन का कुल का पद का प्रतिष्ठा का सब बातों का विचार किया जाता है सिर्फ प्रेम को छोड़कर और इसलिए तो बाल विवाह प्रचलित रहा है क्योंकि अगर युवक हो जाए तो फिर तुम प्रेम को बिना विचारे छोड़ ना पाओगे फिर प्रेम भीतर घुस जाए और प्रेम सारे अर्थशास्त्र को बिगाड़ देता है प्रेम खतरनाक सूत्र क्योंकि प्रेम जानता नहीं कि कौन भंगी है कौन ब्राह्मण प्रेम जानता नहीं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है प्रेम तो सिर्फ प्रेम की भाषा जानता है और सब कुछ नहीं जानता प्रेम संप्रदाय नहीं जानता इसलिए तो मैंने कहा कि विवाह और संप्रदाय समानांतर हाँ, प्रेम गरीब और अमीर को नहीं जानता अमीर गरीब के प्रेम में पड़ सकता है गरीब सम्राट के प्रेम में पड़ सकता है प्रेम बड़ा खतरनाक है कहा ले जाएगा कुछ पता नहीं इसके ट्रेन को काट बाल विवाह की रात किया गया ताकि प्रेम का कोई उपाय ही न रहे फिर जब बचपन से ही एक पुरुष व्यक्ति पास रहते तो उनके बीच एक तरह का लगाव बन जाता है जो प्रेम नहीं वो लगाव वैसे ही जैसे बहन और भाई के बीच होता है साथ साथ रहने से पैदा होता है उस लगाव में प्रेम करना तो कोई तूफान है ना कोई आंधी वो लगाव और फॉर्मल वो तो किसी भी के साथ बहुत दिन तक रहो तो एक लगाव बन जाता है उसके साथ एक मैत्री बन जाती है एक पसंद हो जाती है वो न हो तो खालीपन लगता है वो मौजूद ना हो तो अड़चन मालूम होती है लेकिन उसमें न तो कोई तूफान आता है न तुम्हारे प्राणों में कभी ऐसा उन्मेष उठता है कि गीत चल जाए न कभी प्राणों में ऐसी कोई आंधी आती ऐसा कोई झंझावात कि सब दीवाने कब जाए हथार कब जाए तुम्हारा घर डोलने लगे भूकंप में नहीं उसमें कोई ऐसी कोई समाधि का कोई क्षण नहीं आता एक सामाजिक व्यवस्था चल रही है घर गृहस्थी चलती यह तो बड़ा खतरनाक है संन्यास जैसा खतरनाक है विवाह समाज की संस्था है प्रेम परमात्मा का आमंत्रण समाज ने अपनी व्यवस्था कर ली क्योंकि प्रेम के साथ समाज अड़चन में पड़ेगा प्रेम कहा ले जाए ऐसा कुछ पता नहीं किन रास्तों पर चलाएगा कुछ पता नहीं कहां भटकाएगा कुछ पता नहीं क्या परिणति होगी आखिर में उसका कुछ पता नहीं प्रेम का रास्ता का नहीं है प्रेम से तुम्हें बचा दिया गया है और प्रेम से बचने के कारण तुम्हारे जीवन में एक कमी है क्योंकि प्रेम के बिना कोई भी तृप्त नहीं होता के बिना तुम जियोगे लेकिन मरे मरे जियोगे अपने को ढोते बोझ की तरह प्रेम ही तृप्त कर सकता है क्योंकि जहां दो व्यक्ति मिलते हैं और अहंकार छूटते हैं उस दो व्यक्तियों के मिलने के क्षण में वहां एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद होता है जिसका नाम परमात्मा है क्योंकि जहां भी अहंकार छूटते हैं वहीं परमात्मा प्रवेश कर जाता है वो उसका द्वार है अगर दो व्यक्तियों ने ठीक से प्रेम किया एक दूसरे को ठीक से प्रेम करने का अर्थ उन्होंने अहंकार हटा के प्रेम किया अहंकार के माध्यम से नहीं क्योंकि जब अहंकार के माध्यम से प्रेम होता है तब तुम दूसरे को प्रेम नहीं करते तुम दूसरे के द्वारा अपने को ही प्रेम करते हो तब तुम दूसरे की फिक्र नहीं कर रहे हो दूसरे का शोषण कर रहे हो तब दूसरे की हिफाजत नहीं है दूसरे का उपयोग है तब दूसरा एक उपकरण है एक वस्तु है व्यक्ति नहीं जब अहंकार बीच में होता है तो जीवंत व्यक्तियों को वस्तुओं में बदल देता पत्नी पति वस्तु में जैसे हो सकते एक दूसरे का उपयोग कर रहे कोई पुलक नहीं है कहीं कोई फूल नहीं खिलता कहीं कोई सुगंध नहीं बिगड़ती जहां भी कोई व्यक्ति अहंकार को बीच में ले आता है वहां तपिस्म वहां मालकियत परिग्रह दूसरे पर दावा कल है संघर्ष तरकीबें की सब राजनीति प्रवेश हो जाती है लेकिन जब कोई अहंकारों को हटा देता है और दो व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं जैसे दो ज्योतियां करीब आके अचानक के खोज रहे उस घड़ी में एक संध खुलती है इस जगत में जहां से परमात्मा छापता है प्रेम परमात्मा की पहली अनुभूति लेकिन प्रेम वंचित कर दिया गया है प्रेम रोक दिया गया है प्रेम के रोक देने के कारण तुम सदा तृप्त हो बेचैन हो परेशान हो कुछ कम कुछ कम मालूम पड़ता है कुछ कम कोई अभाव ये भी साथ नहीं की किस चीज का अभाव है क्या चाहिए धन भी है धन भी इकट्ठा कर लेते फिर भी अभाव पद भी है प्रतिष्ठा मिल जाती फिर भी अभाव और ये भी तुम्हें साथ नहीं कि अभाव किस बात का जैसे एक प्यासा आदमी जिसको प्यास किसी तरकीब से भुला दी गई वो धन इकट्ठा कर लेता फिर भी अभाव क्योंकि प्यास थी पानी की जरूरत थी धन की जरूरत न थी फिर इस तरह के प्यासे लोग जिनको अपनी प्यास भूल गई है और जिन्हें प्रेम का सूत्र खो गया है जिनके हाथ छीन लिया गया है और झूठा संस्थाएं जिनके हाथ में दे दी प्रेम के काव्य की जगह जिनको विवाह का गणित पकड़ा दिया गया है प्रेम के धर्म की जगह जिनके हाथ में प्रेम का अर्थ शास्त्र विवाह जो ढोले ये लोग मंदिर मस्जिदों में जाते हैं घुसने से प्रार्थना करते हैं इनका अभाव इनको लगता है कि शायद प्रार्थना से पूरा हो जाए शायद योग से पूरा हो जाए शायद ध्यान से पूरा हो जाए और मैं तुमसे बात कह देना चाहता हूँ कि धार्मिक पंडित पुरोहित मंदिर मस्जिदों के अधिकारी इस सत्य को बहुत पहले समझ गए कि अगर लोगों को प्रेम से वंचित कर दो तो ही मंदिरों और मस्जिदों में भीड़ रहेगी अन्य क्योंकि जब प्रेम न मिलेगी तब वो प्रार्थना मांगेंगे अगर जगत में प्रेम अवतरित हो जाए मंदिर मस्जिद पंडित पुजारी अपने आप हो जाए तो हमारी हृदय मंदिर हो जाए ये सबसे बड़ी खतर खतरनाक साजिश है जो आदमी के साथ की गई है तो उसका प्रेम का सूत्र काट दिया गया तब वो बंधा हुआ अपने आप मंदिर आएगा आज नहीं कल कल नहीं परसों उसे मंदिर आना ही पड़ेगा क्योंकि उसे लगेगा कि कुछ कम है जो तो संसार में पूरा नहीं होता तो संसार से बाहर कहीं खोजे जिस दिन दुनिया में प्रेम परिपूर्ण रूप से मुक्त होता है कोई प्रेम पर बाधा और अड़चन न होगी और प्रेम स्वयं का निर्णय होगा माँ बाप का नहीं परिवार का नहीं समाज का नहीं किसी राजनीति का नहीं जिस दिन प्रेम स्वयं का आविर्भाव होगा जिस दिन भीतर का हृदय खिलेगा उस दिन मंदिर मस्जिदों से लोग अपने आप विदा हो जाएंगे प्रेम का मंदिर काशी मंदिर फिर कोई और मंदिर की जरूरत नहीं और तब प्रार्थना उठेगी जब प्रेम पकता है तो पक्के प्रेम से जो बंद उठती है वही प्रार्थना है जब दो व्यक्ति इतने लीन हो जाते हैं एक दूसरे में कि एक हो जाते हैं तब उनको पहली दफा पता चलता है कि जब दो के एक हो जाने से इतनी अपरसीम सुख की संभावना पैदा हुई है तो काश हम अनंत के साथ एक हो जाए पहली दफा विचार उठ पाए जब एक के साथ खोकर दो बूंद के मिलने से ऐसा महासुख बनता है तो जब बूंद सागर से मिलती होती जब सागर बूंद से मिलता होगा तब तब क्या घटता होगा प्रेम स्वाद देता है प्रार्थना में जाने का बल देता है प्रार्थना की तरफ पैर उठने की हिम्मत साहस आता है लेकिन प्रेम से ही तुम बच रहे हो तो तुम कायर हो गए तुमने तो दुस्साहस रखा ही नहीं लाओ से कहता है कि तीन खजाने हैं मेरे जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं पहला है प्रेम दूसरा है अति कभी नहीं लाओ से परमात्मा की बात ही नहीं करता प्रार्थना की बात ही नहीं करता क्योंकि कहता बीज दे दिया आप तो बाकी घटनाएं घटती रहेंगी बीज को बो दिया अंकुर निकलेगा अपने आप तुम्हें कुछ करना नहीं वृक्ष बड़ा होगा घी उसकी छाया होगी फूल लगेंगे फुलाएंगे ये सब अपने से होगा तुम बीच की संभाल कर लेना इसलिए प्रेम की बात की है प्रार्थना की नहीं परमात्मा की नहीं अनेकों को लगता है कि लाओ से नास्तिक लाओ लाओस से महाआस्तिक और तुम्हारे मंदिर मस्जिदों में जो बैठे हैं वे सब नास्तिक उनकी साजिश ज्ञान है षडयंत्र खतरनाक उन्होंने तुम्हारे जीवन को इस तरह से अवरुद्ध कर दिया है इस तरह से काट दिया है उन्होंने बीच को ही दग्ध कर दिया है तब तुम जो भी करते हो सब झूठा झूठा ऐसी मेरी प्रती है जिस व्यक्ति का प्रेम झूठा उसका पूरा जीवन झूठा होगा क्योंकि प्रेम तक के संबंध तुम सच्चे न हो सके तो तुम तक के संबंध सच्चे हो सकोगे जब प्रेमी के साथ तुम सच्चे और प्रमाणिक ना हो सके तो ग्राहक के साथ हो सको बाजार में समाज में जब निकटतम के साथ तुम झूठे हो जब पत्नी को देख कर तुम मुस्कुराते हो क्योंकि मुस्कुराना चाहिए जब तुम पिता के पैर दबाते हो क्योंकि दबाना चाहिए जब तुम गुरु को देख के खड़े हो जाते हो कि खड़ा होना चाहिए तब सब खो गया तुम्हारे जीवन में सब झूठ होगा ये निकटतम बातें थी जो हृदय के बहुत करीब थी ये झूठी हो गई जो बहुत दूर है वो कैसे सच्ची होगी प्रेम सच्चा हो तो तुम्हारे जीवन में सब तरफ सच्चाई आनी शुरू हो जाएगी प्रेम तुम्हें बड़ा करेगा फैलाएगा और धीरे धीरे अगर तुमने एक व्यक्ति को प्रेम में रख पाया तो तुम औरों को भी प्रेम करने लगोगे मनुष्यों को प्रेम करोगे प्रेम की लहर बढ़ती जाएगी पौधों को प्रेम करोगे पत्थरों को प्रेम करोगे अब सवाल ये नहीं है कि किसको प्रेम करना है आप तुम तो एक राज समझ लोगे कि प्रेम करना आनंद है किसको किया ये सवाल नहीं है अब तुम ये भूल ही जाओगे कि प्रेमी कौन है नदी झरने पहाड़ पर्वत सभी प्रेमी हो जाएंगे लेकिन जैसे झील में कोई पत्थर फेंकता है तो छोटा सा बोतल उठता है लहर का फिर फैलता जाता फैलता जाता दूर तकों तक चला जाता है ऐसे ही दो व्यक्ति जब प्रेम में पड़ते हैं तो पहला तुम पहला है गिरता है जीव में प्रेम फिर फैलता चला जाता है तुम परिवार को प्रेम करते हो समाज को प्रेम करते हो मनुष्य को पशुओं को पौधों को पक्षियों को झरनों को पहाड़ों को फैलता चला जाता है जिस तुम्हारा प्रेम समस्त में व्याप्त हो जाता है अचानक तुम पाते हो परमात्मा के सामने खड़े हो प्रेम पकता है तब सुवास उठती है प्रार्थना की जब प्रार्थना परिपूर्ण होती है तो परमात्मा तो आपके आ सकते तुम उसे न खोज पाओगे तुम सिर्फ प्रेम कर लो वो खुद चला है तुम उसे खोजने जाओगे भी कहो तो पता ठिकाना भी तो मालूम और डर तुम उसे खोजने तुम गए तो तुम किसी साजिश के हिस्से क्योंकि काशी में काबा में शादी के अड्डे वहां तुम उलझ जाओ और वहां बैठे लोग तुम्हें समझाएंगे कि प्रेम पाप है और छोड़ो प्रेम और प्रार्थना करो ये बड़े कुशल लोग हैं ये बड़ा गहरा खेल खेलते और उन्होंने इतने दिन से ये जहर तुम्हारे मन पर फेंका है कि तुमको भी उनकी बात जैसे की बात तो ठीक ही है प्रेम को लगाव है आसक्ति है प्रार्थना भी लगाव है और आसक्ति और परमात्मा परम आसक्ति जीवन अधूरा है यहाँ हम अलग थलग नहीं है यहाँ हम सब संयुक्त है हैं यहाँ तुम्हारा होना और मेरा होना दो लहरों की तरह नीचे सागर एक है हर एक लहर दूसरे लहर से मिल रही है मिलने की तैयारी प्रेम से मिल जाने का अनुभव तत्ल प्रार्थना होता देता है और जब प्रार्थना पूर्ण होती है आंख तुम खोलते हुए द्वार कर पाते हो घुसना करते वो सदा से खिलाती तुम तैयार न थे तुम्हारी तैयारी चाहिए तनाव से कहता है पहला सूत्र प्रेम पहला खजाना प्रेम दूसरा है अति कभी नहीं ये भी बड़ा समझ लेना है क्योंकि मनुष्य का मन अतियों में जीता है या तो तुम एक तरह की अति करते हो या दूसरे तरह की अभी कुछ दिन पहले की बात है कि युवक इंग्लैंड से आया वो उपवास में भरोसा करता है उपवास को उसने अपनी साधना बना रखा है शरीर दिनहीन हो गया है ऊर्जा क्षीण हो गई है उसने समझाया कि अगर मरना ही हो तो बात अलग मजे से करो उपवास लेकिन जीवन ऐसे न चलेगा और ऊर्जा अगर इतनी क्षीण है तो तुम ध्यान कैसे करोगे क्योंकि ऊर्जा तो चाहिए ही और ध्यान के लिए तो बहुत ऊर्जा चाहिए क्योंकि वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है तुम इतनी बड़ी क्रांति की तैयारी कर रहे हो तो बड़ा ईंधन चाहिए अगर तुमने सब ही राख कर डालने का तय किया तो एक आज जिम्मेदारी से काम न चलेगा दावा नल विराट लपटे चाहिए ध्यान की यात्रा पर निकले हो अगर थके मांदे तुम यात्रा के पहले ही हो तो कदम कैसे उठाओगे कठिन था उसे समझना फिर उसने समझने की कोशिश की तीसरे दिन वो आया और उसने कहा आपने मुसीबत में डाल दिया मैं बहुत ज्यादा खा गए अब मेरे पेट में दर्द है और मैं बड़ी मुसीबत में पड़ा उपवासी अगर उपवास छोड़ा और ज्यादा खा लेगा असल में ज्यादा खाने वाले लोग ही उपवास करते उन दोनों में संबंध है जहां जहां ज्यादा भोजन उपलब्ध हो जाता है वहां वहां उपवास उपवास का संप्रदाय प्रचलित हो जाता है अभी अमेरिका में बड़े जोर से चल रहा है उपवास करो हर चीज के लिए उपवास कारगर है बीमारी है तो उपवास किसी स्त्री को सुंदर होना है तो उपवास शरीर को सडोल बनाना है तो उपवास स्वस्थ बनाना है तो उपवास सबके लिए उपवास अमेरिका इस समय ज्यादा भोजन की अवस्था में ऐसी दशा भारत में भी आई थी उसी वक्त जैन पैदा हुए आज से पच्चीस साल भारत ऐसे ही समृद्ध था जैसा अमेरिका बड़ा धंधा मिला बड़ा लोग कहते हैं दूध दही की मठिया बैठी खूब था भोजन करने को और लोगों ने खूब भोजन किया होगा तब से उपवास महत्वपूर्ण हो गया ये तुमने कभी ख्याल किया कि जब गरीब आदमी का धार्मिक दिन होता है तो वो भोज करता है जब अमीर आदमी का धार्मिक दिन आता है तो वो उपवास बड़े मजे की बात है लेकिन सीधा धरा गणित तो साफ वो तो मान गरीब है साल भर तो हिंदुस्तान पे चलता है हिंदू गरीब है तो किसी तरह गुजारते हैं लेकिन जब उत्सव का दिन आ जाता दिवाली आ गई तो गरीब आदमी भी मृत्यु खरीद लाता लक्ष्मी की पूजा का दिन आ गया जन्माष्टमी आ गई श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है अभी तो सब अच्छे खाओ पियो मौज करो ईद आ गई मित्रों को भी निमंत्रित करो पूरी में मुसलमान कपड़े रोज तो बदल नहीं सकते और ईद के दिन नए कपड़े पहन के निकल आते धार्मिक दिन उत्सव का दिन जैन का उत्सव का दिन आए वो उपनिषद के वचन क्योंकि सांघर तो उत्सव मतलब से नहीं रहा साल भर तो अति भोजन से ही रहा है तो धार्मिक दिन का कुछ तो भिन्न बनाना चाहिए तो वो भूखा मर जाए और भूखा मरने से साल भर में जो स्वास्थ्य हो गया था उससे लौट तो परिवर्तन के दिनों में जैन भोजन तो नहीं करते भोजन की कल्पना सिंटे खूब सोचते हैं बर्तन कब पूरे हो प्रत्येक प्रार्थना के बर्तन कब पूरे हो जाए और दस दिन के बाद क्या क्या करना है क्या क्या खाना है इसकी फेरत बनाते तो लाभ है इससे भी कि भोजन में सिर्फ स्वाद लौट आता है इतना ही लाभ और कोई लाभ नहीं अतीत में जो बच जाए वही अवस्था है न तो उपवास न अति भोजन जितना शरीर के लिए जरूरी है बस उतना न इस तरफ ज्यादा न उस तरफ ज्यादा क्योंकि दोनों हालतें रुग्णता की है स्वास्थ्य मध्य बिंदु स्वास्थ्य संतुलन है या तो लोग बहुत सुनेंगे या बिल्कुल नहीं सुनेंगे या तो कोई काम ज्यादा कर लेंगे पूरी जान लगा देंगे और या फिर बिल्कुल छोड़ के बैठ जाएंगे नहीं ऐसे न चलेगा अभी कितनी देर ठीक करते हो तुम अति कभी जीवन की शैली नहीं बना सकती कैसे बनाओगे अति को जीवन की शैली अगर उपवास करोगे कितने दिन जियोगे अगर ज्यादा खाओगे तो भी कितने दिन जियोगे भूख भी मार डालती है अति भोजन भी मार डालता है अगर जीवन का सार समझना है तो मध्य में कहीं संतुलित जितना जरूरी है बस उतना नींद भी जितनी जरूरी है बस उतनी भोजन भी उतना जितना जरूरी है श्रम भी उतना जितना जरूरी है विश्राम भी उतना जितना जरूरी और हर आदमी को खोजना है अपना संतुलन क्योंकि इसके लिए कोई बंधी हुई कोटी और धारणा नहीं हो सकती क्योंकि लोग अलग अलग हैं बूढ़े आदमी मेरे पास वो कहते हैं नींद नहीं आती वो पूछता हूँ कितनी आती वो कहते हैं मुश्किल से तीन चार घंटे और बूढ़े आदमी को तीन चार घंटे पर्याप्त बच्चा पैदा होता है बीस घंटे से मध्य वक्त में बीस घंटे सोने जा रहा है जन्म के समय जरूरत है बीस घंटे क्योंकि बच्चे के शरीर में इतना काम चल रहा है अगर वो जागेगा तो काम में बाधा पड़ेगी बच्चे के शरीर में निर्माण हो रहा है उसे तो सोया रहना उचित है बढ़ रहा है गर्म में तो चौबीस घंटे सोता है क्योंकि उसका जरा सा भी जांच लेना बाधा पड़ेगी जब भी तुम्हारा शरीर थका होता है और निर्माण की जरूरत होती है नींद उपयोगी इसलिए तो चिकित्सक कहते हैं अगर बीमारी हो नींद आए तो बीमारी से भी खतरनाक नींद का ना आना पहले नींद लाओ बीमारी के पीछे से करेंगे क्योंकि आधी बीमारी तो नींद ही ठीक हो जाएगी तुम जब जागे रहते हो तो तुम बाधा डालते हो और तुम्हारी ऊर्जा बाहर की तरफ बहती रहती प्रकट हो जाते हो सारी ऊर्जा भीतर लगातार घूमने लगती तो निर्माण होता है बुरा आदमी तो मर रहा है निर्माण तो पक्का बंद हो चुका अब तो चीजें टूट रही अब तो सेल नष्ट हो रही अब तो जो भी मिट जाता है वो फिर नहीं बनता है तो उसकी नींद कम हो गई स्वाभाविक अब उसको नींद की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए तो वो सोचे कि हम जवान जब थे तो आठ घंटे सोते थे लेकिन तुम जवान थे नहीं सोते कि आठ घंटे जवानी आठ घंटे सोते थे तुम बच्चे तो थे बीस घंटे सोते थे तुम नहीं सोते थे बचपन बीस घंटे सोते और फिर हर व्यक्ति के जीवन में रोज बदलाहट होती है तो व्यक्ति को सजग होकर संतुलन को संभालना चाहिए जड़ नियम जो बना लेता है वो हमेशा असंतुलित हो जाएगा क्योंकि तुम रोज बदल रहे हो बचपन में नियम बना लेते जवान हो गए अब क्या करोगे जवानी में नियम बना लिया बूढ़े हो गए अब क्या करोगे नहीं आदमी को सजग रह के रोज रोज संतुलन खोजना पड़ता है क्योंकि तुमने कभी किसी नट को देखा हो रस्सी पे चलते तो ऐसा थोड़ी एक दफा संभाल लिया संतुलन में चल पड़े बस एक दफा पहले कदम पर संभाल लिया चल हर कदम पर संभालना होता है क्योंकि हर कदम नया कदम हर यात्रा नई यात्रा हर पल नया है तुम्हारा पुराना पल का जो तुमने तय किया था वो नए पल में काम न आएगा तो एक लकड़ी हाथ में लिए रहता जब बाएं जरे ज्यादा झुकता तो है तो दाएं लकड़ी को झुका देता है तो तो दाएं जरी ज्यादा झुकने लगता है तो तत्म बाएं झुक जाता है तभी संतुलन होता है बाएं और दाएं के बीच में प्रतिबंध तथ्यात्मक रूप से संतुलन को साधता है हड्डियों के बीच उन्हें गद्दा की सीट में समझना होता हो और सीजन एक लटकी ही यात्रा है वहां दोनों तरफ खड्डे और खाई इधर टोको खाई उधर टोको ठीक मध्य में घटक की धार की तरह बारी के रात इसलिए नाव से कहता है पति कभी नहीं नेवर टू मच किसी भी चीज का नहीं दूसरा कोई तुम्हारे लिए सिद्धांत तय नहीं कर सकता विनोवा उठते हैं सुबह तीन बजे उनके आश्रम में सभी सुबह तीन बजे उठे अब ये पागल बने विनोवा बोले हो गए और उनको जनता रहा तीन बजे उठना क्योंकि वो आठ बजे सोने के चले जाते उनके शरीर को राशि खाता है भूमि के लिए नहीं आए इसलिए उनके हाथ में तुम्हारा आदमी को दिन भर जमाई लेते आंखें बंद करे परेशान रहोगे ब्रह्म मुहूर्त में क्या उठे पूरा दिन निद्रा का आक्रमण होता है एक आदमी मेरे पास आया उसने स्वामी शिवानंद की किताबें पढ़ ली उसने लिखा है कि चार घंटे से ज्यादा सो गए समझ का लक्षण रियाज में हकीमत में सबकी जवान वो चार घंटे सोने लगा थॉमस ने तो थॉमस ने तो छुटकारा पाने जब चार घंटे सोने लगा तो दिन भर थॉमस आने लगा पहले सात घंटे सोता था तो सात घंटे तामस अब चौबीस घंटे तामस हो जब उसने पाया कि तो तामस घटते जा रहा है उसने वर्णन की किताबें और उसने गौर से देखी दोनों संबंध में क्या कहते गुरु बताया कि अगर तामस न मिटता तो उसका मतलब कि तुम भोजन ज्यादा कर तो भोजन एक तरह कर दिया और कमजोरी इन दो पंखों से वो परमात्मा की यात्रा कर लेंगे चौबीस घंटे भूखे और भोजन का चिंतन और चौबीस घंटे प्यासे नींद के और जमाइए मेरे पास आए मैंने उनसे कहा कि किताब खत्म हो गई इसमें और कुछ लिखा कुछ और लिखा हो जल्दी कर लो नहीं तुम खत्म हो जाओ शिवानंद का शरीर देखा है फोटो देखी ये उपवासी मालूम पड़ते सेवानंद को चलाने के लिए दो आदमियों के हाथ कंधों पर रख के उनको उठाना पड़ता आनंद की फोटो को देखते फिर किताब पढ़ते पर लोगों को कोई तुम होश से जीने की उसने कुछ भी पकड़ ले कुछ भी पकड़ ले हेमानंद की मृत्यु कैसे हुई मस्तिष्क निरक्षक स्टेलिन शिवानंद की मस्तिष्क में रक्तस्राव की मृत्यु का मतलब है चित्र में बहुत तनाव आसान थी स्टेलिन की वो बिल्कुल मौजूद राजनीतिक किसी और ढंग से मरे लेकिन सन्यासी रहती है छोटी चमत्कार होश रखो सुनो समझो अपने जीवन को पहचानो और अपने मार्ग एक एक कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाओ और ध्यान रखो कि गति ना हो जाए तो मैंने कहा कि शुरू करो अगर परमात्मा को ऐसा होता की तामस की भी कुछ जरूरत ही नहीं तामस ने बनाया ही ना होता की जरूरत है तामस में कुछ निंदा योग नहीं निंदा योग तभी जब तामस में अति हो जाए तो निर्देश होने लगे तो फिर निंदा योग है लेकिन निंदा तामस के कारण नहीं है निंदा अति के कारण है अन्यथा तामस की भी जरूरत है क्योंकि तामस विश्राम का सूत्र है राजा श्रम का सूत्र है तामस विश्राम का सूत्र है और दोनों संतुलित हो तो तुम्हारे जीवन में सत्य की ज्योति चलेगी त्रिकोण ट्रायंगल समझ लो नीचे के दो कौन तामस और राजा स्वरूप का उठा हुआ कौन जब दोनों संतुलित हो जाते तब तुम्हारे भीतर संतुलन के माध्यम से धीरे धीरे सत्य का स्वरण शुरू होता है सत्व का अर्थ है परम संतुलन अल्टीमेट बैलेंस इसलिए लाओस से कहता है संसार में अति कठिन नहीं और दूसरा संसार में प्रथम कभी मत वही दौड़ लोगों को परमात्मा से वंचित करवा देती ऐसा हुआ एक राजनीतिक मित्र के साथ में किया था वही कार ड्राइव कर रहे थे क्या कहते थे हम जबलपुर से अलाहाबाद बीच में एक जगह मुझे ऐसा लगा कि रास्ता तो गलत पकड़ लिया मिल के पकड़ते थे तो हम जा रहे थे जबलपुर की तरफ वो तो अलग रास्ता है मैंने उनसे कहा क्या कर रहे तुम भूल गए उन्होंने कहा भूला नहीं एक आदमी कार उनके आगे निकाल ले गए वो जा रहा है छतरपुर और जब तक वो उसकी कार को पीछे न कर दे अब अलाहाबाद नहीं जा दो घंटे लगे आखिर उसको पीछे करते रहे जब उसको पीछे कर दिया तब दो घंटे में लौट आए क्योंकि अलाहाबाद जाना एकदम जरूरी था लेकिन जिंदगी में ऐसा मामला नहीं है रास्ते इतने साफ नहीं तो अलग बात है जिंदगी में रास्ते बहुत जटिल है और जिंदगी में रास्ते ऐसे हैं तो वापस नहीं लौटा जा सकता गए तो गए तुम सब यही करते रहे हो एक आदमी के पास तुमने देखी कि कार तुम्हारे पास नहीं चाहिए अब तुम्हें दौड़ने लगते तुम भूल ही गए एक कार की तुम्हारी जरूरत थी या इसके पास इसकी जरूरत पैदा हो गई अब तुम अपना सारा जीवन दांव पर लगा के पहले एक कार तब तक कोई न बड़ा मकान बनाइए अभी देख तो हो सकता है कि तुम उसके बड़े मकान में बना अब तुम बड़ा मकान बनाओगे तब तक कोई किसी फिल्म अभिनेत्री से शादी करके आ सकते रास्ता चलते और लोगों को तुम्हें पीछे करना आखिर में तुम पाते हो तुम लोग पीछे हुए कि नहीं हुए तुम बर्बाद हो गए जहां तुम्हें जाना था जो तुम्हारी नियति थी वहां तो तुम पहुंच ही ना पाए हर किसी ने तुम्हें लुभा दिया और हर किसी ने तुम्हारे रास्ते में बिगड़ खड़ा कर दिया और हर, हर किसी ने तुम्हें रास्ता सुझा दिया तुम्हारी कोई नियति है तुम तो ऐसे ही अर्थहीन नहीं हो तुम कुछ होने को हो तुम्हारे जीवन से कुछ फलित होने को तुम्हारी कोई गुना होती है तुम्हारे भीतर चित्र की मार्ग पर जाए कितने विघ्न वासना की खड़ी कर रहे हो मार्ग पर छूट ही जाता कुछ और नहीं लाओ से इसलिए पिछड़ा देता है वो कहता है जीवन में कभी तुम प्रथम तुम्हारे की चिंता मत करना the third is never be the first in the world कोशिश ही मत करना अगर तुमने इसे जीवन की गहनतम आस्था बनने के प्रतिस्पर्धा में सी और किसी के साथ मेरी महत्वाकांक्षा की कोई दौड़ नहीं चल रही तो ही तुम अपने लिए देखो उपलब्ध हो पाओगे अन्य तुम सार अरब आदमी है उसमें बड़ी धक्का धक्का मुक्की है और हर एक अपने अपने ढंग से अपने काम में लगा है मुला नसरुद्दीन एक दिन मस्त रमजान के दिन थे और सारे मुसलमान गाँव के इकट्ठे थे जब सब घुटने टेक कर नमाज पढ़ने को बैठे मुला नसरुद्दीन का अंदर का पीछे से थोड़ा उठा पजामे अच्छा नहीं लगता इस झटका मार तो उसका अंदर का ठीक कर दिया उसने आगे वाले आदमी का अंदर का ठीक ही था एक झटका उसने मारा उस आगे वाले आदमी ने पूछा कि क्यों भाई क्या बात है उसने कहा मुझसे मत पूछ उसने शुरू किया पीछे वाले ने हम तो सिर्फ अनुकरण कर राज क्या है हमें पता नहीं मगर कुछ न कुछ होगा नहीं तो आदमी कर सही हर जगह तुम डोमाडोल हो जा रहे हो कोई भी तुम्हें कुछ भी समझाया जा रहा है चारों तरफ से हजारों प्रवाह तुम्हारे मन से पड़ रहे हैं सब तुम्हें अपनी तस्वीर से ही बड़ा बाजार है दुकानदार तो सब तुम्हें बुला रहे कि हमारे साथ तुम अगर तो तुम इस बाजार में अनेकों समझो अपनी जरूरत पहचानो उसे पूरा करो अपनी आवश्यकता पहचानो उसे पूरा करो लेकिन दूसरे की प्रतिस्पर्धा नहीं क्योंकि दूसरा तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाएगी अपने को पहचान कर इस भरे बाजार से अपने को बचा के निकल जाना है और बचाने का सूत्र एक ही हो सकता है कि तुम पहले होने की आकांक्षा छोड़ दो तुम अंतिम होने को राजी हो जाओ तो ही तुम अपनी नियति को पा सकोगे जीसस ने कहा है जो प्रथम है इस संसार में वे मेरे राज्य में अंतिम खड़े होंगे और जो अंतिम है वे प्रथम अंत में खड़ा होना एक बड़ा राज है क्योंकि जो अंत में खड़ा है वो प्रतिस्पर्धा में उत्सुक नहीं होता जो अंत में खड़े होने को राजी है जो पहले के अंत में खड़े और कहा गिराओगे आखिरी जगह बैठे अब यहाँ से और कहा बताओ कहते हैं गांव से कहीं भी जाता तो सभा होती तो पीछे आखिर में जहाँ जूते उतारे जाते वहीं बैठते फिर उससे पूछे की कि से तुम यहाँ क्यों बैठे उसने कहा कि यहाँ से कोई कभी पकाता नहीं क्योंकि हमने बड़ी फजीयत होते देखी लोगों की जो प्रथम बैठते सिंहासनों पर जो बैठते हैं उनके काम तो हमेशा कोई ना कोई खींच ही रहा है सिंहासन पर तो बैठे नहीं घिसने वाले आ हुए वो पहले से तैयार थे तुम तो उनको धक्का मुक्का देते तो वहां पहुंच गए जो तुमने किया है वही पे तुम्हारे साथ करना चाह रहे एक ही राज है इस जगत में शांति से जीने का अपनी नियति पूरी कर लेने का उस अर्थ को उपलब्ध हो जाने का जिसके लिए परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया वो काफी तुमसे फूट जाए वो गीत तुम गा लो वो नृत्य तुमसे पूरा हो सके एक ही आता है और वो तीसरा खजाना है लाओ का कि तुम न तो काम से छोड़ दो तुम प्रतिस्पर्धा छोड़ दो तुम्हारा जीवन जियो तुम दूसरे के जीवन का अनुकरण क्यों करते हो दूसरे को जाने दो जहां जाता हो वो उसकी मौज है उसका रास्ता होगा तुम उसके पीछे क्यों हो किसी को मकान बनाने का राज बनाने दो तुम अगर अपने झोपड़े में प्रसन्न हो तो तुम व्यर्थ की दौड़ में क्यों पड़ जाते हो क्योंकि दौड़ समय लेगी शक्ति लेगी जीवन लेगी और जो तुम पालोगे उससे तुम्हें कभी तरक्की न मिलेगी क्योंकि वो तुम्हारी कभी चाह ही न थी इसलिए तो इतनी अतृप्ति नहीं मिलती तो तकलीफ है मिल जाए तो तुम पाते वो साथ नहीं क्योंकि तुम्हारी वो चाय ही न थी अच्छी तरह लोग प्रशंसा करते हैं तुम्हें प्रशंसा पकड़ जाती है तुम्हें गुटगुटी शुरू होती तुम्हारा अहंकार कहता है ये इससे अच्छी बजा के बता दे ये तो ठीक है कि शायद गुस्सा करो तो बजा भी लोगे इससे अच्छी लेकिन अगर बांसुरी बजाना तुम्हारे जीवन का हिस्सा ही न था तो जिस दिन तुम अच्छी भी बजा लोगे उस दिन भी तुम पाओगे कुछ पाया नहीं तुम्हें व्यस्त गया कभी नकल में मत पड़ो प्रतिस्पर्धा नकल में ले जाती प्रतिस्पर्धा अनुकरण में ले जाती तब तुम अपने स्वभाव से वंचित हो जाते हो चुप्त हो जाते हो महत्वाकांक्षी तो व्यक्ति हमेशा स्वभाव से चुप्त होता रहता है भटकता रहता है सब सिर्फ अपने को छोड़कर अपने घर नहीं आता और सभी घरों पर भटकता रहता है और अखीर में पाता है कि बिना घर पहुंचे कब्र करीब आ गई तब न लौटने की सामर्थ्य रह जाती घर में रह और जब तक तुम अपनी नियति पूरी न कर लो ये जीवन का आधारभूत नियम है तुम वापस बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में लेके जाओगे तुम यहाँ कुछ उत्तीर्ण करने को यहाँ तुम कुछ अतिक्रमण करने के लिए जैसे गए कुछ जानने सीखने कुछ दौड़ होने तुम दौड़ हो जाओगे तुम ही उठा लिए जाओगे जिसको कहा है कि जैसे कोई मछुआ जाल फेंकता ऐसा परमात्मा रोज जाल फेंकता है मछुआ मछलियां पकड़ लेता लेता है पति को वापस अगर डाल देता है ऐसा ही परमात्मा जान फेंकता है बहुत पकड़े जाते हैं बहुत कम चुने जाते हैं केवल वे ही चुने जाते हैं प्राणेश्वर को कोई लेना देना नहीं तुम खिल जाओ फूल बन जाओ वो तुम्हारे नियति की परिपूर्णता का प्रतीक है तभी तुम मंदिर की वेदी पर स्वीकार मत सोचे प्रेम के जरिए आदमी अभय को उपलब्ध होता है अति नहीं करने से आदमी के पास आरक्षित शक्ति का अतरण खत्म होने की दृष्टता नहीं करने से आदमी अपनी प्रतिभा का विकास कर सकता है और उसे प्रौढ़ बना सकता है Through love, one has no fear. Through not doing too much, one has amplitude of reserve power. Through not presuming to be the first in the world, one can develop one's talent and let it mature. और प्रौढ़ होके ही तुम स्वीकार किए जा सकोगे तुम्हारी अर्चना का दीप परमात्मा के मंदिर में प्रवेश न पा सकेगा तुम जो होने को भेजे तुम उठाइए जाओगे चुनिए और जरूरी नहीं कि तुम पिकासो जैसे बड़े चित्रकार हो जाओ तब तुम चले जाओ जरूरी नहीं कि तुम कालिदास जैसे कवि हो जाओ तब चले जाओ ये सवाल ही नहीं तुम अगर जूते भी सीते हो और अगर जूते सीने में भी तुमने अपना पूरा तन प्राण अपनी पूरी ऊर्जा संलग्न कर दी और अगर जूता सीना भी तुम्हारा प्रेम और प्रार्थना बन गई है और जूते सीने को भी तुमने परम सौभाग्य की तरह स्वीकार कर लिया है ऐसा हुआ कि अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बना अमेरिका का लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो पूरे दिन घर का न था घर ही घर का था असल में एक समाज का लड़का था लोगों को बड़ी बेचैनी थी कि संहार और प्रेसिडेंट हो गया जिस दिन पहले दिन उसने शपथ ली और अपना पहला वक्तव्य दिया सीनेट में एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि महानुभाव लिंकन ये मत भूल जाना कि तुम्हारे बाप मेरे बाप के जूते सीने पर आज थी झांसी से लेकिन लिंकन ने जो उत्तर दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण था लिंकन ने कहा कि मैं समझ क्यों आया गया लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये बात उठाई गई क्योंकि इस क्षण में मैं अपने पिता को शायद भूल जाता याद न कर पाता तुमने याद दिलाती और जहां तक मैं समझता हूँ मैं उतना अच्छा प्रेसिडेंट न हो सकूंगा जितने अच्छे मेरे पिता जमा वही प्रेसिडेंट और तो जमात थोड़ी सुने जाएंगे कितने कितने कुशल और लिंकन ने कहा कि जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पिता की तरफ से मेरे पिता के जूतों के संबंध में कोई शिकायत कभी नहीं आई वे कुशल थे अद्भुत थे अपनी सदा को पा लिया था वो आनंद मैं इतना अच्छा प्रेसिडेंट न हो पाऊंगा आखिरी हिसाब में तुमने क्या किया ये नहीं पूछा जाएगा तुमने कैसे किया आखिरी हिसाब में तुमने बहुत धन इकट्ठा किया बहुत बड़े मकान बनाए बड़े चित्र बनाए मूर्तियां गढ़ी ये नहीं पूछा जाए तुमने जो भी किया क्या उससे तुम तृप्ति पा सके जो भी किया क्या तुम संतुष्ट लौटे जो व्यक्ति संतुष्ट लौटता है परमात्मा की तरफ वही उसके हृदय में विराजमान हो सके जगति खोजो दूसरे को भूल जाओ दूसरे से कुछ प्रयोजन नहीं प्रेम से आदमी अभय को उपलब्ध होता है और जब तक तुम प्रेम को उपलब्ध न होगे अभय भी उपलब्ध न होगा प्रेम के बिना तो आदमी कपता ही रहता है ऐसे क्यों क्योंकि प्रेम के बिना जीवन में सिवाय मृत्यु के और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता प्रेम के अनुभव से ही अमृत की पहली झलक आती है फिर अभय आ जाता है अति न करने से मनुष्य के पास शक्ति संयोजित होती है अपूर्व शक्ति इकट्ठी हो जाती है क्योंकि वो गमाता नहीं न दाई तरफ न बाई तरफ न वो लेफ्टिस्ट होता है ना राइटिस्ट पॉपुलिस्ट को बचाता है उसके पास इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है कि ऊर्जा का परिमाणात्मक बल गुणात्मक क्रांति कर देता है जैसे सौ डिग्री तक पानी को गर्म करो पानी भाप बन जाता है निन्यानबे तक करो नहीं बनता अंठानबे तक नहीं निन्यानबे तक भी नहीं बनता एक डिग्री का फासला है लेकिन अभी भी नहीं बनता तीस डिग्री और पानी की यात्रा बदल गई पानी नीचे बहता था भाप ऊपर उठने लगी आयाम अलग हो गया पानी दिखाई पड़ता था भाप सदृश होने लगी आयाम बदल गया एक ऊर्जा का संगठन चाहिए भीतर उस ऊर्जा के होने मात्र से ही उसकी बढ़ती हुई उठता हुआ तल उसका बढ़ता हुआ संग्रह तुम्हारे भीतर गुणात्मक परिवर्तन ले आता है विज्ञान एक सिद्धांत को मानता है और वो सिद्धांत यह है every qualitative change is through quantitative change सब परिवर्तन सब क्रांतियां परिमाण के आधिक्य से गुणात्मक क्रांतियों में रूपांतरित हो जाती है वही चीज निन्यानबे डिग्री पर पानी की वही सौ डिग्री पर बन जाती है बड़ी ऊर्जा चाहिए होगी बड़ी यात्रा है तुम्हारे पंख बड़े समझ चाहिए तुम बीच में चुक न जाओ संयम संयम का अर्थ है अति से बच जाना तुम्हारे तो संयमी भी अतिवादी है मेरे संयम का समझ लेना तुम तो उनको संयमी कहते हो जो अतिवादी घर छोड़ दिया पत्नी को छोड़ के भागते धन नहीं छूते उपवास करते हैं सिर के बल खड़े हैं आंटों पर लेते इनको तुम प्रस्तुत कहते आपने ये संयमी नहीं है ये तुम्हारा ही रोग है उल्टा खड़ा हो गया मध्य में होता है संयमी आदमी में अति की कठोरता नहीं होती मध्य का माधुर्य होता है सैन्य आदमी प्रफुल्ल होता है न उदास न विक्षिप्त रूप से हंसता हुआ प्रफुल्ल एक सहज प्रफुल्लता होती है एक स्मित होता है सैन्य आदमी के जीवन में एक मुस्कुराहट होती है और एक माधुरी होता है तुम्हारे संयमी तो बड़े कठोर इतने कठोरता तो मध्य में है ही नहीं तुम जैसे धन के पीछे लगे हो वो धन छोड़ने के पीछे लगे तुम जैसे स्त्रियों के पीछे भाग रहे हो वो दिशा अलग हो अति समान है तुम अगर दीवाने हो कि कैसे ज्यादा खा जाए वो दीवाने हैं कि कैसे और खाने में कमी कर दे दोनों के मध्य में कहीं छिपा है संयम अति न करने से आदमी के पास शक्ति आरक्षित होती है संयम उपलब्ध होता है और संसार में प्रथम न होने की संसार में प्रथम होने के पागलपन से जो बच जाता है वो शांत हो जाता है उसकी सब अशांति हो जाती है और उस शांति में वो छाप अपने भीतर की प्रौढ़ता की तरफ गतिमान होने लगता है बाहर की दौड़ न रही नहीं बना के खुद की मूर्ति निर्मित होती है शायद दुनिया उसे जान भी ना पाए कि वो कब जिया और कब चला गया शायद उसकी पग ध्वनि भी ना सुनाई पड़े सभी बुद्ध जाने नहीं जाते बहुत से बुद्ध तो चुपचाप विदा हो जाते पता भी नहीं चलता क्योंकि तुम उसे पहचान भी ना पाओगे वो इतने अखीर में खड़ा था इतने अंत में खड़ा था उसका कोई भी दावा न था जिसको जैन फकीर कहते हैं तो इतना अति साधारण हो गया कि उसे कोई पहचान भी नहीं पाता पहचान के लिए भी तो पता आने चाहिए झंडे चाहिए वो दुनिया के बाहर हो गया अगर तो तुम मुझसे पूछो तो इसे मैं संन्यास देता हूँ हिमालय पे जाने से संन्यास नहीं होगा क्योंकि वहां भी प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी कि कोई शिवानंद कोई अखंडानंद कोई फलानंद वो अभी तक आगे है कि फलाना शंकराचार्य होके मठ पे बैठ गया अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे वहां भी राजनीति चलेगी शंकराचार्य भी अदालतों में खड़े रहते मुकदमे रखते शंकराचार्य कौन है तुम कहीं भी भाग जाओगे उससे हल न होगा अगर भागना ही है तो अंतिम होने में आ जाओ तुम दौड़ और तब तुम पाओगे तुम्हारा सहज स्वभाव धीरे धीरे विकसित होने लगा तुम प्रौढ़ता को मेच्योरिटी को सघनता को अंतिम केंद्र को उपलब्ध हो सकोगे जिसने बाहर की प्रतिस्पर्धा छोड़ दी उसकी अंतर यात्रा शुरू हो सकती ये तीन खजाने हैं लाओ से कहता है संभाल के रखना इन पर पहरा देना ये बचाने योग्य और इनको जिसने बचा लिया उसने सब बचा लिया इनको जिसने खो दिया वो भिखारी ही जिएगा और भिखारी ही मरेगा तुमसे मैं यही कहता हूँ भिखारी मत बनना भिखारी मत मरना भिखारी बनकर मत शादी करे आज